वचन काया छाया मल माया के भावनो द्रव्य करम भावनो द्रव्य करम बालक की भ्रांति स्वीकारिए स्वीकारिए अनन्य शरण दे भवरण में शरण दे भवरण में सर्वस्व मेरापन अर्पण है ज्ञानामृत के मोती चुगते मन हंसा मान सरोवर में सत्यम शिवम और सुंदरम की श्री दिव्य चक्षु की ज्योति में सर्वस्व मेरापन अर्पण है सर्वस्व मेरापन अर्पण है सूरज का कैसा तर्पण है चंदा के शीतल किरणों में समभाव रखे निकाल करे उठते अंतर ध्र भीतर में उठते अंतर द्वंद्व भीतर में सर्वस्व मेरा पन अर्पण है दिवस संध्या उषा कैसे अद्भुत क्रम नियम बंदे क्रम नियम बंदे मन सागर के ज्वार भाटा मन के ज्वार भाटा निश्चित और व्यवस्थित है सर्वस्व मेरा पंद अर्पण है जीव भले एक दर्शन है मूल आत्म शाश्वत दर्पण है व्यवहार हो चाहे क्रोडो संग आहे क्रोडो संग निश्चय केवल भगवन में स्व नीचे सर्वस्व मेरापन अर्पण है मूड आत्मा का है उद्धारक मूड मुझ शुद्धात्मा जागृत करो जागृत करो अपूर्व अगोचर और उल्लसित अपूर्व अगोचर और उल्लसित हल ज्योति प्रकाशित हो प्रकाशित हो सर्वस्व मेरापन अर्पण है अन देखी केड़ी आक्रम से जो मोक्ष द्वार खुला कर दे खुला कर दे परमात्म स्वरूप हे प्रकट पुरुष रूप है प्रकट पुरुष आप ही है मेरे शुद्धात्मा है मेरे शुद्धात्मा सर्वस्व मेरापन अर्पण है है भगवान तुम्हारे शरणों में सुचरणों में उमारे शरणों में सुचरणों में सो चरणों में सो चरणों में हिंदी माँ परम प्रार्थना भी बोला लेते हैं हिंदी में आपने शायद नहीं सुनी होगी लेकिन हिंदी भाषी में ज्ञान विधि होती है तो गाने का मौका मिलता है ऐसे प्रैक्टिस हो जाती है ना अंध्यारा कोटि युग का कोटि युग का पल साठ में रोशन करो शन करो ज्ञानाग्नि प्रकट ज्ञान की प्रकट ज्ञान की पापों को भस्मीभूत करो पापों को भस्मीभूत करो तमशो मा ज्योतिर्गमयी मूरत में ही समय सार टंकोत्कीर्ण ज्ञान अभेद से प्रत्यक्ष हो साक्षात्कार तेतीस कोटि देवी देवता शांति कलश बरसाइए सामायिक शुद्ध आत्म की ज्ञानी अपूर्व लाइए वाणी दादा भगवान की तीर्थङ्करां प्रतिध्वनि निश्चल विधि सुचरण की सुचरण की स्वातम सिद्धि तारिणी दावानल की आग में બ્રહ્માંડે જ્વાલા અંતરદા અંડે જ્વાલા અંતરદા પાતાલી કરણ કરુણામૃત જરા मृत जरा बरखा अम्मी वृष्टि करे अमृत धारा प्रेमांजलि जलते जीवों को शीत कर चरम चौबीसी सामूहिक सर्वज्ञ शरणं गच्छामि ॐ ह्रीं दादा भगवन् शर् शरण गच्छामि ॐ ह्रीं दादा दादा भगवन् सर्वज्ञ शरणं गच्छा में जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वो प्रश्न दादाजी को ही पूछेंगे पुरोहित जी प्रश्न दादाजी को ही पूछेंगे आपके जो प्रश्न है वो हाँ हाँ आने वाले हैं इसलिए हाँ बोलिए Hmm. करूँ मुँह जरूरत नहीं है चलेगा आज नहीं करेंगे इनका जैसा घूमने दो उनको जितना घूमना है वो कल यहाँ के बोल रहे थे ये लोग महात्मा लोग पूछते क्यों नहीं है बोले ये सब लोग समझ के बैठे हैं हम्म। वो हमारा इम्तहान लेते हैं हमारा पक्का होता है हम भूल नहीं गए हैं ना वैकेशन में रिवीजन होता है नहीं हाथ नहीं लड़ा जय सच्चिदानंद सत्संग करने वाले सारथी होते वो महारथियों का राह देखते हैं कि वो कहाँ निर्देश करे कहाँ जाना है निर्देश नहीं करेंगे तो गाड़ी वहीं रुकी रहेगी बोलिए જય સચ્ચિદાનંદ માઇક દો માઇક એક બીજું માઇક આ બાજુ આપવાનું બીજું એક બાજુ ઈચ્છા વિચાર અને ભાવ એમાં શું તફાવત છે શું એનું इच्छा विचार और भाव में क्या फ़र्क है इंग्लिश कब से बोलते शुरू हो गया इंग्लिश हम्म? हम हिंदी बोलते हैं ये हिंदी प्रदेश में आए हैं गुजराती अभी हमको आती नहीं है विचार विचार के बारे में तो हम जानते हैं कि विचार आते रहते हैं और हमने दादा से जाना कि विचार चाहते हैं क्योंकि वह एक हमारे मन की खाली होती हुई परिस्थिति है लेकिन उस विचार को हमारी बुद्धि पढ़ती है उस विचार को हमारी बुद्धि पढ़ती है ऐसा है ना हमारे महात्मा लोग इतने उदार है वो बोलते नहीं हैं लेकिन हम फ़ोन लेके बातें करना शुरू करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि जाके बाहर जाए ऐसा नहीं अगर इतनी इमरजेंसी है तो बात करना नहीं तो बोलो बाद में बात करते हैं तो ये खाली होती होती हुई एक मन की स्थिति है लेकिन वहाँ पर बुद्धि प्रवेश कर देती है और क्या बताती है क्योंकि बुद्धि ऐसी अंदर से प्रेरणा देती है और बताती है ये अच्छा विचार है ये बहुत बुरा विचार है जिसके कारण उसकी असर हमें होती है फिर क्योंकि फिर अहंकार को उसके असर में आ ही जाना पड़ता है अहंकार यानी हम क्योंकि हम दृष्टि पाए हुए हैं तो एक तरफ बोलते भी है मैं शुद्धात्मा हूँ जब हम बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ तो हमारा काम क्या बनता है मैंने पूछा हमारा काम क्या बनता है हमारा काम क्या बनता है प्रश्न है नाश्ता इडली कितनी खा ली हमारा काम क्या बनता है जल्दी बोलो ना जानो नहीं देखो ही क्योंकि जानना परिणाम है परिणाम को करना नहीं होता है बात सही है ना जो परिणाम से होने वाला है या परिणाम से होता है उसको करना नहीं होता है वो तो बात सही है ना वो तो हम बोल देते ज्ञाता दृष्टा रहो उसमें क्या है क्योंकि जवाब तो हम जानते ही है कौन नहीं जानते जवाब सब लोग बोल रहे गलती हो गई प्रतिक्रमण कर लो सही बात है ना लेकिन प्रतिक्रमण कितने करने या कितने होते हैं उसका मतलब बनता है वह काम का है यानी ऐसी कुछ बातें हमारे कान में पड़ जाए वैसे तो दादा के सब अनुभव वचन ही है जो जो बोलते हैं हमने जो जो आज तक सुना वो सब उनका अनुभव का निचोड़ी है सही है उनकी कौन सी बात और कितनी बातों को लेकर हमारी नींद हराम हुई वो बोलो तो उनकी बातों में गलती है कि हमें सुनने में गलती है तो ये भाव कर सकते हैं क्योंकि ये सब मटेरियल दादाजी ने बताया कि सब कचरा ही है हम चाहे कितना भी अच्छा अपने आप को सवार ले सवारते तो है ना कि नहीं संवारते हर रोज़ संवारते दिन में कितनी बार संवारते कि हम कहीं बुरे ना दिखे वो तो है ना लेकिन वह जागृति तो हम लेके आए हैं वो जन्म से हमें मिली है और वह जागृत रहना ही पड़ेगा वरना चार लोग बोल भी लेंगे अगर ज्ञान में रहते नहीं है ना तो कोई बोलता नहीं <laughs> लेकिन अगर बाल ठीक नहीं है मुझे थोड़ी ऐसी वैसी हो गई कि यार दाढ़ी भी ठीक से तो नहीं की स्नान नहीं किया क्यों आज कपड़े ऐसे डाल के आए अंकल ये आप रोज रोज एक ही एक कपड़े क्यों पहनते अभी अभी सुबह में वो लड़के ने पूछा अंकल आप एक ही एक कपड़े क्यों पहनते आपने स्नान नहीं किया <laughs> ऐसा बोल दिया क्योंकि स्नान करने के बाद कपड़ा बदलते हैं ना तो आपने क्यों वही के वही कपड़े पहने स्नान नहीं हुआ तो मन वो खाली होती हुई स्थिति है उसमें ये बुद्धि हस्तक्षेप करती है ये अच्छे विचार है ये बुरे विचार है और जहाँ अच्छा लगता है वहाँ हम उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं जैसे कि एक विचार आया और ऐसा लगा कि नहीं ये करने योग्य है तो वो तो खाली होती हुई परिस्थिति ही थी मन की लेकिन वह इच्छा का स्वरूप ले लेती है अब उसमें कितनी तीव्रता से हम अंदर उतरते हैं उस उसके पीछे उसके ऊपर वो इच्छा की तीव्रता होती है और एक बार जो भी बात इच्छा के स्वरूप ले लेती है विचार तो वो तुरंत ही हमें उस कार्य में धक्का दे देती है और हम उसके पीछे लग जाते हैं और ऐसे बोलते ना वो अपने मन के पीछे जैसे कि रहता ही है बैक ऑफ आवर माइंड कि ये करना है ये करना है ये करना है ये हमारी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई ऐसा करके और ये तो समझ में आया भाव क्या चीज़ है कि हम इच्छा रखते हैं कि हमें ऐसा करना है अभी जिनको दृष्टि मिली है वह भाव करने वाले रहे नहीं हकीकत में भाव वो भाव कर्म को लागू पड़ता है जहाँ भाव है वो भाव कर्म को लागू पड़ता है अभी हमें भाव कर्म रहा नहीं हम जो कहते हैं बोले नौ कलम की भावना ये नामदारी से करवाते हैं हम तो वो हमारी इच्छा है क्योंकि शुद्धात्मा दृष्टि के साथ हम ये सब साधन करते हैं अगर बोले कि जागृत नहीं है यानी लक्ष्य हाजिर नहीं है तो भी क्योंकि हम क्या मानते हैं पूछेंगे आप कौन है क्या बताएंगे क्या बताएंगे क्या बताएंगे आप राजेश हैं अच्छा सही में कौन है वो कभी भी बोलेंगे कि मैं सही में नामधारी हूं करके ठीक है तो यह भूमिका हमारी है ही लेकिन वह अगर जागृतता से नहीं है तो वो इस तरह से प्रतीति रूप रहती ही है प्रतीति रूप रहती ही है लेकिन जितनी जागृति के साथ ये सत्साधन होते उसका फल अच्छा आता है वरना वो जैसे सोते सोते कुछ काम कर लेते सोते सोते बोल दिया कि मैं पैसा दूंगा और फिर जागृत होने के बाद बोलते लाओ पैसा तो बोलते क्या है अरे आपने बताया था ना मैंने कब बताया था ऐसा बोलेंगे ना ऐसा है तो क्योंकि दृष्टि मिलने के बाद भाव कर्म रहते नहीं है हकीकत में सभी कर्म की भूमिका से हम मुक्त हो गए हैं यह एक कृपा से हमारे लिए हो गया है उसे बहुत समझने की ज़रूरत है बहुत समझने की ज़रूरत है और जैसे हमें हमें जागृत कर दिया है तो हमारा काम यह बनता है कि अब ये नामधारी के मन वाणी काया में क्या क्या चलता है वो कोई और बताने से पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए लेकिन यहाँ तो कोई और बताते कि आपने ऐसा कहा या आपने ऐसा किया तो बोलेंगे आपको ऐसा लगा होगा लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा हमने ऐसा नहीं किया बोलते हैं बोलते हैं यानी हमें जागृत कर दिया है खुद को सुनने के लिए खुद को देखने के लिए और सबसे बड़ा वो धीमे धीमे होता है अपने मन को पढ़ने के लिए अपने मन को पढ़ने के लिए तो यह भूमिका से अभी हमें हमारा काम यह बनता है कि सुबह में ही तय करो वो फाइल से हम तय करवाते हैं यह अंतरात्मा भूमिका की हमारी हमारा पुरुषार्थ है कि सारे दिन में मन वाणी काया से जो जो कुछ होगा जो जो संजोग में से गुजरेंगे दादाजी मुझे देखना है क्योंकि देखना ही पुरुषार्थ है अभी क्या बाकी है जानना बाकी नहीं है आपने जान लिया है कि मैं शुद्धात्मा हूं लेकिन वो जो जाना है वो हमारा जाना हुआ नहीं है ये अगर इतना है तो आप सोचो किसी को ऐसा कुछ कर दिया तो क्या हो जाएगा ऐसे ही यानी लोगों के साथ व्यवहार करते हुए ये बहुत जागृति आवश्यक है लेकिन वो तो हम देखते ही नहीं है ना क्योंकि ये आवाज़ तो तुरंत आ जाती है वो आवाज़ तुरंत आती नहीं है क्योंकि वो असर अंदर से होती है और हम खुद की असर नहीं पहचान पाते दूसरों की असर कैसे पहचानेंगे लेकिन आखिर में तो इस भूमिका पर हमें आना ही है तो यह सुबह में ही हम तय करेंगे और अभी बोलो कि जानने में क्या बाकी है दादाजी ने बताया जिन्होंने जाना कि मैं शुद्धात्मा हूँ उन्हें कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं अभी सही है सही है सही है ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है यानी ज्ञान मिलने के बाद आपको ज्ञान में कुछ फर्क पड़ता है ज्ञान बढ़े या कम हो ऐसा दिया है नहीं ये हमें पूरी समझ के साथ उसको समझ लेना है कि ज्ञान में बढ़ावा नहीं होता है समझ में बढ़ावा होता है ज्ञान तो मिल गया ज्ञान विधि के बाद दादाजी सिक्का मार दिया तो बोला आप काम हो गया आपका अभी समझो कौन समझाएगा कौन समझाएगा जो हमने जाना है जो दादा से हमने जाना है वो हमें कौन समझाएगा नहीं हमारा ही शरीर मन वाणी काया आपको समझाएगा लेकिन ये एक दूसरे जो हम मिलते रहते हैं एक दूसरे का हमें लाभ मिल जाता है और लाभ लेने के लिए हमें कैसे रहना है वो बहुत महत्व का है अगर मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने सब कुछ जान लिया है तो जिन जो ऐसे समझ रखते हैं जिनसे यह समझ हमें प्राप्त हो सकती है हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे क्योंकि अंदर से ऐसा हो गया कि हमने सब कुछ समझ लिया है और अगर समझ भी लिया है चलो मानते हैं को, कोई बोलेंगे कि आपने नहीं समझा वो कैसे बोलेंगे समझ लिया है तो छोटी छोटी बातों की असर नहीं होनी चाहिए आपको लेकिन छोटी छोटी बातों की असर होती है असर होती है हमें पता नहीं चलता लोगों को पता चल जाता है ऐसा नहीं होता है कभी चिड़चिड़े तो होते ही नहीं ना कभी दिमाग तो हिलता नहीं वो एक छोटी बच्ची बोली थी उनके घर में आता माझी सटक ली तो <laughs> उसको बोला कि कहा देखा पिक्चर में देखा बोलो वो ऐसा सटक जाता नहीं है ना बोलिए ना बोलिए ना वो कभी सटक दिए पता ही नहीं चलता है नहीं यानी ये अभी हमें यही समझाएगा वो समझने के लिए देखना ज़रूरी है और देखना वही पुरुषार्थ है और हमारा काम यही है देखते रहो देखते रहो बस और लेकिन हमारी जो आदत सी हो गई है कि और लोग क्या करते हैं ना वो देखते हैं इतना जुलम भी मत करो आ जाइए साहब क्योंकि फिर दादा हमें डांटेंगे कि आप क्या ध्यान रखते हैं तो बोले देखो बोलते हैं कि आईने का स्वभाव है दिखाना आईने का स्वभाव है दिखाना शुद्धात्मा का स्वभाव है जय सच्चिदानंद दिखाना बोले आप क्या करते हैं शुद्धात्मा का स्वभाव है दिखाना एक बार शुद्धात्मा जागृत होने के बाद क्या कभी ऐसा होता है कि शुद्धात्मा गैर हाजिर हो गया बोलिए ना नहीं होता है कभी कभी तो हो सकता है कि नहीं वो शुद्धात्मा हाजिर नहीं थे बोलिए ना शुद्धात्मा हाजिर ही है और वैसे हाजिर तो थे ही हम जागृत नहीं थे लेकिन यह ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद तो हमें पता चल ही गया कि वो जागृत ही है यानी प्रज्ञा स्वरूप से वह जागृत है अपना काम करता ही रहता है और वह क्या दिखाने का काम जैसे आईना दिखाता रहता है आईने के पास तो हमें जाना पड़ता है लेकिन ये शुद्धात्मा का आईना तो हमारे साथ साथ ही है नींद में भी हमें साथ है बोले चलो नींद में तो हमें इतनी जागृति रहती नहीं है तो आज सुबह में उठे तो उठने के बाद हमारे साथ जो थे वो बोले पूरा सोने का समय बेकार गया सोने का समय बेकार गया उसका मतलब क्या सोते वक्त जो जागृत रहना था वो जागृति बगैर ही सो गए तो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है पछतावा होना अच्छी बात है क्योंकि पछतावे से एक जागृति बढ़ेगी कभी ना कभी कि हमें यह करना है वह ख्याल में है ना तो इस तरह से शुद्धात्मा तो दिखाता है लेकिन हमें बताया कि वो क्या बताते हैं परिणाम क्यों नहीं आता है तो बोले आपका निश्चय कच्चा है वो भी निश्चय तो हमें प्राप्त हो गया प्राप्त नहीं हुआ तो फिर कौन सा निश्चय कच्चा है बोलिए ना आज्ञा धर्म के संबंध में हमारा जो निश्चय चाहिए दादाजी ने बताया कि जिस दिन से हमें ज्ञान मिला तब से हमारी दृष्टि ऐसी हो गई बहुत सारी परिस्थितियां आई कि हमारी दृष्टि को ऐसे करे लेकिन ऐसे की ऐसे ही रही वह उनका निश्चय था वह उनका पक्का निश्चय था तो अभी हम ये सत्संग में स्वाध्याय में आते हैं तो हमारा हेतु यही है और हकीकत में यही होता रहता है हमारा ये निश्चय मजबूत होता जाता है निश्चय स्वरूप प्राप्त हुआ है और ये आज्ञा धर्म के पक्ष में जो हमारा निश्चय को बलवान करना है वो जो जो निश्चय में पक्के हुए हैं उनका लाभ ऐसे ही मिल जाता है वो बोले कि ऐसा करके बैठे रहो बर्तन ऐसा नहीं रखना बर्तन ऐसा रखेंगे तो वो मिलता ही रहेगा क्योंकि बोले कि अनुभव बुलवाना नहीं पड़ता है अनुभव खुद बोलता है क्या बताया जय सचिदान अनुभव बुलवाना नहीं पड़ता है अनुभव खुद बोलता रहता है और आखिर का अनुभव कैसा है कि वो बोले बगैर हमें समझ में आ जाता है और वह कौन सा है बोले कि सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाएंगे जय सच्चिदानंद सिमंदर स्वामी भगवान प्रत्यक्ष हो गए तब उनसे कोई वार्तालाप नहीं करना है कोई पूछना नहीं है उनके दर्शन पाने से ही हमारा ये आखिर का जो आवरण है वो गिर जाएगा गिराना नहीं पड़ेगा लेकिन वे प्रत्यक्ष होने के लिए हमें काफ़ी कुछ होमवर्क करना पड़ेगा ये स्कूल में जाते हैं तो होमवर्क देते हैं दादा से हमने ज्ञान मिला तो दादाजी ने कोई होमवर्क दिया है हमको टीचर ही ना बोलते बोलो जब टीचर ना बोलेंगे तो होमवर्क कहाँ है क्योंकि हमें होमवर्क की परिभाषा इसे मानते हैं कि कुछ करना होता है कुछ करना होता है और वह भाषा में भी ये करना आएगा ही हमारा लेकिन उस करने के पीछे जो पुरुषार्थ बताया है वो देखने का पुरुषार्थ है करना तो भाषा है तो बोलेंगी ये करो वो करो लेकिन उसके पीछे समझने का देखने का पुरुषार्थ है और सबसे बड़ा पुरुषार्थ या विघ्न बोलेंगे या अंतराय बोलेंगे वो अनिश्चय का है कई बार हमने सुना नहीं सुना तो हमारा निश्चय इतना बलवान हो जाए कि सोते वक्त भी हमें सोने ना दे शरीर सो जाएगा लेकिन हम जागते रहेंगे अब तो सोने के साथ हम भी सो जाते हैं आराम से सो जाते हैं किसी को कितनी बार पुकारना पड़ता है हिलाना पड़ता है तब कभी जाग जाते हैं और हिलाने के बाद भी जागृत होने के बाद आंखें भी ऐसा करके खुलती नहीं है ऐसा देखा है आंखें ऐसा करते हैं ना तो आंखें ऐसी खुलती नहीं है ऐसा करके ये हकीकत की बात करता हूँ और कुछ लोग उठाएंगे हाँ करके बोल देंगे तो आखिर में यह निश्चय ही अभी हमारा पुरुषार्थ है और निश्चय जो नहीं हो रहा है वही हमारा सबसे बड़ा अंतराय है इसीलिए सबके बीच में अपने आप को धकेल दो क्या करेंगे दादाजी ने बताया कि व्यवस्थित के बाहर होने वाला नहीं है दादाजी को देखा है वो अपने आप को धकेल देते हैं दादाजी को देखा है वो अपने आप को धकेल देते हैं हमारे बीच में बोले महात्मा को तो बहुत पता नहीं चलेगा लेकिन ये बुजुर्गों को तो पता चलना ही चाहिए बुजुर्ग यानी बड़े हैं ना बड़ा बड़ा कारोबार संभालते हैं तो ये समझना आ जाना चाहिए तुम बीच में मत बोलो आप बोलो आपकी क्या इच्छा है ऐसा नहीं सुना हम लोग कई बार बीच में बोलते को बोलने दो सुना है ऐसा है अपने आप को जैसे कि वो शेर का मुंह खोलते हैं अपना सर अंदर डालते हैं और देखते हैं कि ये बंद करते हैं कि नहीं करते फिर उन्होंने कई बार बताया कि मैं संभालना चाहता हूं उसको कैसे बोलेंगे I want to be taken care of Gujarati में वो पकड़ में नहीं आता है I want to be taken care of कि लोग हमारा कितना ख्याल करते हैं वो हम देखना चाहते हैं और फिर जब नहीं होता है तो हम समझ लेते हैं कि ये हमारा व्यवस्थित है और फिर आखिर में उनका अनुभव तो है ही पक्का ऐसा ही होता है इस कलयुग में इस पांचवें आर्य में ऐसा ही होता है आप सोचिए कि हमने कितनी बार उस वचन का उपयोग किया और परिस्थिति को स्वीकार किया कई बार अपने आप को ही ऐसे टटोल के सोचने पर मजबूर करना है और बात को समझ लेना है कि ये वचन जो निकले है तो उसके पीछे कुछ बड़ा बहुत बड़ा कारण है और वो कारण को समझ समझ के पक्का कर लेना है तो ये देखने की बात जो है वही हमारा काम रहा है और एक उसको क्या बोलेंगे प्रमाणभूत वचन हमें ऐसा बताया है जब देखना और जानना साथ साथ होगा आपका काम पूरा हो गया सुना है ऐसा ऐसा भी बताया है कि देखना और जानना साथ साथ नहीं हो रहा है इसीलिए आपको अनुभव नहीं हो रहा है कितने प्रमाणभूत वचन हमें मिले हैं उसको बैठ के समझना है मुझे समझ या मेरी समझ काम में आएगी दादाजी का तो अल्टीमेट अनुभव हमारे सामने है व्यक्त है लेकिन हम देख नहीं पाते हमें उनको बुलवाना पड़ता है बोलने के बाद समझ में नहीं आता है ऐसा नहीं होता है दादा भगवान ने बताया था कि कोई हमारी सिर्फ आकृति देखे तो मुझे पहचान जाए कि मैं कौन हूँ और आखिर की हद ऐसी कर दी बोले मेरे बाल को ऐसा करे ना तो मुझे पहचान जाए कि मैं कौन हूँ हमने उनको देखा हमने उनको सुना वो पीछे छोड़ गए ऐसे करूँ दादाजी को देखे जाने कितनी बार बरसों से सुनते आए हैं उनको देखते आए हैं फिर भी समझ नहीं पाते तो हम इतनी तो प्रार्थना कर सकते कि दादा कुछ ऐसा करिए कि आप जो है वो हमें समझ में तो आए हमें समझना है बोले कपड़े पहनाने से कोई राजश्री नहीं हो जाते उसी तरह से हमें ताज तो पहना दिया है तो भी हमें ऐसा होना हमारी जिम्मेदारी नहीं हो जाती है ऐसा है ना एक बात थी कि जब हम संयम धाम गए तो तब ऐसा हुआ था कि अभी तो सत्संग में जाना पड़ेगा सत्संग करना पड़ेगा ये कुछ लोग तो पहले से करते थे जो शिविर में जाते थे तो करते रहते थे उनके लिए ये प्रश्न नहीं था मैं मेरी व्यक्तिगत बात करता हूँ मुझे ऐसा लगा कि अभी तैयार होना पड़ेगा लेकिन वो तैयार होना और दादाजी बोलते कि आपको तैयार होना है उसमें बहुत फ़र्क है तो हमने ऐसा सोच लिया था कि कोई पूछेगा तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा तो बोले अब ये सब जवाब तो दादाजी ने आप तो वाणी में बोला है वो आप तो वाणी में आया है तो बोले अब आप तो वाणी पढ़ना पड़ेगा तो नंबर वन से शुरू किया नंबर वन ख़त्म हो गई यानी पढ़ते गए पढ़ते गए फिर सत्संग में तो जाना होता था तो कभी कभी हमें बिठा देते थे हमारा तो इतना अनुभव है नहीं गुजराती बोलने आता नहीं है आता नहीं था तो ये समझ में आया यानी ये पकड़ में आया कि वो जो पढ़ा था ना जो पढ़ा था उसके ही बारे में पूछा गया वो जवाब नहीं दे पाए वो याद ही नहीं आया फिर हम सोचने लगे ये अनुभव नहीं है क्योंकि आप तो आगे पढ़ते गए और जो पढ़ लिया वो भूलते गए यानी वो कुछ याद नहीं रहा तो बोला यह इसमें कुछ गलती है हमारी ज्ञान ऐसा नहीं है कि आगे का पढ़ते रहो और पीछे जो पढ़ लिया वो भूल जाओ ऐसा है स्कूल में तो ऐसा नहीं है ना बिल्कुल तो फिर समझ में आया कि ये हमारी गलती है ज्ञान ऐसा है जहाँ से भी पकड़ो कभी भी पकड़ो हमें पूर्ण समाधान मिलना चाहिए इसीलिए ये दादा का परम ऐश्वर्य है कि आप कहीं से भी अक्रम विज्ञान आप तो वाणी खोलेंगे और जो भी कोई एक वाक्य पढ़ेंगे उसमें पूर्ण समाधान है लेकिन हमारी समझ ऐसी पक्की नहीं हुई है कि उस वचन से हम समाधान ले ले बात सही है बाकी दादाजी ने तो ऐसा कहा हमारे एक ही शब्द एक ही शब्द जैसे कि वैसे अगर अंदर उतर जाए ना तो वो केवल ज्ञान तक ले जाता है बताया है और हमारे ये कलयुग के पांचवे आरे के कान में कितने पड़े शब्द वो हथौड़ा मारे ना ऐसे शब्द पड़े हमारे कान में पढ़े हैं कि नहीं और पता नहीं वो हथौड़ा मार के कहाँ गया नहीं मुझे तो ऐसा कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये गलत है ये गलत है क्योंकि अगर दादा के साथ रहते हैं और बोलो कि दादा के साथ कौन नहीं रहता है जो दादा को मिले हैं वो दादा के साथ रहते हैं कि नहीं तो कौन ऐसा बोल सके कि अरे आप तो दादा के साथ रहते हम तो नहीं रहते यानी हम छटक सकते हैं ऐसा बोल सकते हैं कोई नहीं बोल सकता जो दादाजी को मिले हैं और ख़ास करके जिन्होंने दादा से ज्ञान पाया है वो दादा के साथ ही है हकीकत में क्या है पता है वे दादा के साथ नहीं दादा उनके साथ है लेकिन हम महसूस नहीं करते और महसूस करने के लिए ही देखना है और ये देखते देखते हमें समझ में आएगा कि दादा कैसे हमारे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं प्रज्ञा शक्ति के द्वारा उन्होंने तो कह दिया है कि आपको केवल ज्ञान तक मैं आपके साथ हूँ अभी हमें उनके साथ रहने का पुरुषार्थ करना है ऐसा नहीं लगता है आपको लेकिन हम क्या मानते हैं कि उनके साथ रहे वही साथ रहे बताया जाता है वो स्वाभाविक है वो ना नहीं कहते लेकिन बात तो समझना पड़ेगा ना आखिर में साथ में तो उनकी जूती भी रहती है सोचो साथ में उनकी जूती नहीं रहती जूती का क्या काम हुआ यही बात समझना है और हमारे पास तो उदाहरण भी है श्रेणिक राजा महावीर भगवान को कितने मिले हमसे तो कम मिले थे बिल्कुल कम मिले इतने सालों तक हम सब महात्माओं की गिनती करें ना तो उतने वे नहीं मिले फिर उनके अंदर वो क्या चला कि बताया कि कुछ व्रत नहीं होगा कुछ पचखाड़ नहीं होंगे कोई साधना नहीं होगी फिर भी ये तीर्थंकर बनेंगे महापद्मनाभ तो हमें हमारी समझ ऐसी पक्की कर लेनी है कि जो समझ से हम हमारा काम कर दे यही यह स्वाध्याय का आशय है और यही हमें समझते रहना है कि किन लोगों के साथ हमें अच्छा लगता है किन लोगों के साथ मिलने पर मुंह बिगड़ जाता है कि यह काम मेरे पीछे बाजू में बैठ गए ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा हो जाता है नहीं तो धीमे से बोले जरा मैं आता हूँ पानी पी के और जगह बदल देते ऐसा है तो राजेश भाई समझ गए ये हमें भाव अभी भाव नहीं रहा यानी भाव कर्म नहीं रहे ये इच्छा रही लेकिन जागृति के परिणाम से अब अंतरात्मा भूमिका से ये अंदर काम करता रहता है और वह प्रज्ञा शक्ति हमें टटोल टटोल के जागृत करती रहती है कि अब सोना नहीं है जागो जागो जागो जय सच्चिदानंद हम्म। વાત બહાર જઈને કરી આવે કરવાની હોય તો હા જય Sachchidanand coming event cast their shadow આવી ગયા ચાલો ચાલો દારી આવે છે એટલે ચાલો પદ પદ પદ પદ अपने दिल को साफ बनाकर अपने दिल को साफ बनाकर मिटा दो ही नाचार मिटा दो ही नाचार દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો તાલે ભગવાન દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો मानना असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો अपने दिल को साफ बनाकर अपने दिल को साफ बनाकर मिटा दो ही नाचार मिटा दो ही नाचार सुख की लुट वृत्ति को भौतिक सुख की लुट वृत्ति को समझ लो दुष्टाचार समझ लो दुष्टाचार छुप छुप के जो काम किए हो छुप छुप के जो काम किए पे डर है गलत जिए हो वहीं पे डर है गलत जिए हो जगत विषय में लोलुप लोपदी तो, तो, तो। जगत विषय में लोलुप लोपदी जीवित नर का जीवित नर का મહાદુઃખદાયી મોહ મૂરચના મહાદુઃખદાયી મોહ મૂરચના આગહ અત્યાચાર આગહ अपने दिल को साफ बनाकर अपने दिल को साफ बनाकर मिटा दो ही नाचा मिटा दो ही नाचा ऊपर ग्रह वितराग खड़े हैं ऊपर ग्रह वितराग अच्छा बड़े हैं मन तंत्र वायर वहाँ जुटे मन तंत्र वायर तो वहाँ जुटे अच्छा, हैं अभी मैं तुमने पकड़ के रखूंगा हाँ, चलो चलो चलो ऊपर ग्रह वितराग राग खड़े हैं ऊपर ग्रह वित राग बड़े हैं मन तंत वायर वहाँ जुटे हैं मन तंत वायर वहाँ जुटे हैं नव ग्रह तंतु मन में पड़े हैं नव ग्रह तंतु मन में पड़े हैं लक्ष्मी विषय ग्रह युद्ध से बड़े हैं लक्ष्मी विषय ग्रह युद्ध से बड़े हैं लक्ष्मी विषय में चोरी की नीयत लक्ष्मी विषय में चोरी की नीयत अधर्म भ्रष्टाचार अधर्म भ्रष्टाचार अतिचारों से आगे बढ़ते अधिकारों से आगे बढ़ते असम्य क्लेशक भार असंग क्लेशक भार खाना पीना शक्ति बचाना पीना शक्ति बचाना भीतर बाहिर शांति बढ़ाना भीतर बाहिर शांति बढ़ाना मनुष्य होकर वीर पचाना मनुष्य होकर वीर पचाना सुखद है पुद गल सुखद है पुद गल ज्ञानी पुरुष है मोक्ष सहारा ज्ञानी पुरुष है मोक्ष सहारा तत्व अलौकिक सार अलौकिक सा अपने दिल को साफ बनाकर अपने दिल को साफ बनाकर मिटा दो ही नाचा मिटा दो ही न ज्ञानी पुरुष है मोक्ष सहारा ज्ञानी पुरुष है मोक्ष सहारा तत्व अलौकिक सार तत्व अलौकिक सार तत्व अलौकिक सार तत्व अलौकिक सार जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दिल और ब्रह्मांड इतना छोटा दिल में आ गया जाओ जाओ जाओ ले जाओ जाओ Thank you. જય સચ્ચિદાનંદ આપતો પુત્ર સાહેબો સત્સંગ બરોબર થયો છે ને મજા આવી છે ને અને અમે તો હું સાંભળ્યું કે નવ નવ વાગ્યાથી બધા તમે એમને મચી પડો છો એમની જોડે મેં કહું જોઈએ એટલે હું તો તમને કહું છું એમને ખૂબ એમને મચી પડજો રાતે ઊંઘતા તો ઉઠાડીને એમને મચી પડો એમને છોડશો જ નહીં આવે પણ તમે લોકો કરવા દેશો એવું છોડશે નહીં તમને હા એ બિહારી आपको छोड़ेंगे नहीं वो लोग नहीं नहीं हम वही चाहते हैं <laughs> आप सभी को हाँ हमारा पूरा हक है दादा भगवान ने हम हक दिया है ऐसा हम्म, है इसीलिए घूमते रहते हैं सब सब जगह મસી जी सारा भारत में આજે તો હું ગુજરાતીમાં બોલીશ ચલે ગુજરાતી ચલેગા ને आपका तो मैं पीछे बात करता हूँ आपका जो है ना पीछे बात कर लेता हूँ आपका भी ले लेंगे એમનું છે મારે હિન્દીમાં લેવું પડશે બાકીનું બધું ગુજરાતીમાં दूसरा ले लेंगे ठीक है थोड़ा थोड़ा हिंदी में समझाता रहूँगा मैं हम्म। तो अपने पास ये सत्संग के लिए हम्म, दो पर्ची आई है व्यापार में पर्ची तो व्यापार में चलती है हम जानते हैं सब लोग लेकिन हमारा ये शुद्ध व्यापार है हाँ <laughs> वो पर्ची शब्द हिंदी का है ठीक है गुजराती ચાલો તો વેપાર કરવા માટે ચિઠ્ઠી આવે એકબીજાની અને એકબીજા જોડે વેપાર કરવો પડે એવી રીતે આ બે ચિઠ્ઠીઓ આવી છે આખી આ દિવ્ય માર્ગ માટે આપણું દિવ્ય જીવન જીવવા માટે કારણ કે એ પણ એક મોટો વેપાર છે પરંતુ એ શુદ્ધ વેપાર છે શું કહ્યું શુદ્ધ વેપાર છે અને વ્યવહારમાં પરચીઓ આપે છે એકબીજાને તે શુભાશુભ વ્યવહાર છે કેવો શુભાશુભ વ્યવહાર છે वो तो ચાલે જ છે એ ના હોય તો જગત ચાલે કેવી રીતે हाँ हमारे सुनील जी बोलते हैं उसके ऊपर तो सब आधार है सबका जगत का लेकिन असल व्यापार कोई जानता नहीं क्या है મહાવીર ભગવાને સાડા બાર વર્ષ સુધી એટલો ગજબનો વેપાર કર્યો કે જેથી વર્ધમાન આખા ખાલી થઈ ગયા પકડાઈ રહેલા બધા ખાલી થઈ ગયા પૂરેપૂરા સાડા બાર વર્ષ સુધી પકડાઈ રહેલા કેટલા ભવોથી પકડતા પકડતા આવેલા તે કર્મની ગતિ બહુ અકળ છે અને દાદાએ આપણને એટલું સીધું સાદું કરી દીધું છે આજ્ઞા ધર્મથી કલ્પના નહીં આવે મહાત્માઓ કદાચ કહે કોઈ કે દાદા આમ તો બધી સરળ ને સીધી લાગે છે પણ દાદા ઘણી વખત એ પણ શબ્દ આગળ રહેતો નથી કોઈને ગમે સમપાન પણ આવે જ છે બટ સુધીરભાઈ बट सुनील बट आना आता ही है कभी और इफ तो જો તો આયા કર પણ બટ વધારે આવે છે જો તો બધી છૂટી ગયા લોકો બિહાર યારજી આપ ક્યાં બોલતે હૈ જો તો નહીં આएगा लेकिन बट आता है ये आप लोगों से इसीलिए तो आपसे सीखने आता है सब ये सीखने इसीलिए आता है आप हाँ आपको मना किसी को नहीं करना पड़ेगा रात को दो बजे उठा के आएंगे लाओ मुझे हमें समाधान करो आप तो सुखी हो गए लेकिन हम क्या हमारा क्या आए हम हक है ना हमारा <laughs> पूरा तो ये अपना शुद्ध व्यवहार का सत्संग चालू करे सत्संग सत्संग को ही शुद्ध व्यवहार बताया और शुद्ध व्यापार बताया व्यापार क्यों बोलते हैं हम कि शरीर है इसके कारण शरीर है इसके कारण हम्म व्यापार जहां तक शरीर है व्यापार होगा लेकिन कौन सा प्रकार का व्यापार चल व्यापार चाल है माफ कर जो मतलब अभी हिंदी प्रदेश में आज मैं क्या करूं <laughs> अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है <laughs> તો વેપારમાં તો લેનદેન થયા જ કરે પણ આ વેપાર શુદ્ધ વેપારમાં એક જ પક્ષી વેપાર છે કે દે જાઓ દે જાઓ દે જાઓ દે જાઓ દે જાઓ જો જો कुछ लिया है वो ખાલી કર દો કેવો વેપાર છે આ જે લેવાયું છે જેને ત્યાં શરીર બન્યું છે એને ખાલી થવા દો એ મહાવીર ભગવાનનો બિઝનેસ એમને સાડા બાર વર્ષ કર્યો એક આપણા પ્રખર જૈનભાઈને અમારા વંશરાજજી છે ને એનો ભત્રીજા થાય છે એમના મોટાભાઈનો દીકરો અશોક વંશરાજભાઈ કહા ગયે અશોક तो उनके घर आया था अशोक बैठा तो हमारा प्यारा लड़का है वो तो आया बैठा अरे अशोक तू आ गया अच्छा अशोक आज मुझे एक नई बात समझ में आई क्या सर तो कि माही भगवान कितने अच्छे बिजनेस करते थे तो घबरा गया एकदम साहब क्या बोलते माहिर भगवान बिजनेस करते थे आज समझ में आ गई मुझे ये कैसा हो सकता है तो बिजनेस तो दो प्रकार से होता है ना થોડું बुलवा દો बिजनेस हमेशा मुनाफा का ही होता है बिजनेस उसी को बिजनेस बोलते हैं कोई घाटा के लिए बिजनेस नहीं करता लेकिन शेयर बाजार में घाटा का बाजार चलता है खरीदा जाता है <laughs> बहुत मुनाफा किया हुआ उसको घाटा ले लेता है हुँ? हम्म? क्या क्या लोग करते हैं मनुष्य भेजे सब तो दूसरा तो ये कौन सा भेजे महेश भगवान कैसे बोल सकते हैं वितराग पुरुष को तो बस यही उनकी वितरकता परिपूर्ण तरह से केवल स्वरूप से खुली हो जाए इसके लिए इसीलिए उन्होंने वर्धमान के साथ ये बिजनेस किया वर्धमान के साथ कैसे शुद्ध भाव से कैसे शुद्ध ज्ञान भाव से शुद्ध दर्शन भाव से हुँ? हम्म? और ज्ञान भाव दर्शन भाव क्या है उसमें भी क्रिया है हम बो, हम बोलते हैं कि पुद्गल शरीर जड़ में क्रिया है नहीं जड़ में नहीं आत्मा में भी क्रिया है लेकिन वो क्रिया शुद्ध क्रिया है हिम्मत भी समझ हिम्मत जी हिम्मत सी जी शुद्ध क्रिया है और वही शुद्ध क्रिया में आप हम उसका एक हिंदी वाला ले लेते हैं उनको जरा दो प्रश्न है दो तीन वो ले लेंगे हे दादा आपकी जय हो अब हम आपकी जय हो बोलते हैं ना तो हम हम सबकी आपकी भी जय हो जाती है वही सच्चिदानंद स्वरूप है हमेरा अंदर का समझे ना वही सच्चिदानंद स्वरूप का सच्चिदानंद स्वरूप से हमारा बिजनेस चलता रहता है शरीर है इसी कारण समझे ना वो पांच आज्ञा है जो पांच इंटरेस्ट दिए थे ना आपको आप बैठे थे मेरे साथ हाँ। लेकिन वो परिचय नहीं ना अभी क्या कभी आते हैं कभी एक साल में आते हैं अगले साल नहीं भी आना बने कुछ मालूम नहीं मैंने मतलब ऐसा हम बोल नहीं पाते नहीं तो ये लोग अरे ऐसा नहीं नहीं आना ही पड़ेगा ऐसा बोलेगी उन लोग <laughs> हमारा भी मिलाप मिलाप और कांति भाई तो हमने हिम्मत सिंह जी पूछते हैं ये रिटायर्ड इतना सिंसियर डीएसपी के क्या डेप्यूटी एडिशनल हाँ रिटायर्ड हुए एडिशनल हम्म? है तो कृष्ण ने अर्जुन को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराया वो दो दफे कराया पहले उसको व्यवहार समझ में नहीं आता था वो व्यवहार कई कई ढंग से है अपने खुद के फायदे के लिए अपना खुद का फायदा क्या कि जो मुनाफा हुआ था उसका घाटा हो जाने दो ये उनका फायदा था तो अर्जुन को ही समझा रहे थे हुँ? हम्म? अर्जुन तू मेरा साला है फिर भी मुझे समझा था और तू मुझे भगवान मानता है क्या करूं तो संबंध था उनको उनका और कृष्ण भगवान ने अपनी ही बहन को गलत हाथों में न जावे इसके लिए उसने नटखट से ट्रिक की बोलते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को दिला दिया और बड़े भाई की बहुत इच्छा थी कि जो पहला है उसको दे दो ने उनको जाने दो ने और पहले वाला बहुत जोर वाला था तो नहीं तो उठा के ले जाए ऐसा था लेकिन उसको एक कर्म के जीवन के व्यवहार में कैसे कैसे बीज कर्म के पड़ जाते हैं वो ये महाभारत बहुत अच्छा उदाहरण है समझे और कृष्ण भगवान सभी संबंध थे पांडवों के राज में सभी का फिर भी उन्होंने किसी संबंध का पक्ष नहीं लिया क्यों कि खुद वो वासुदेव का पक्ष में नहीं थे लेकिन वासुदेव का पक्ष वाले ने वासुदेव को बताया कि ये जो डाउन ट्रोडन है गिरे हैं उसको उठाओ और जोर वाले को क्या होता है गिरा है उसको ज्यादा मारते हैं अगर जल में डूबता नहीं तो बचाओ बचाओ बचाने को जाता है पर उनको डबा देता है ऐसा होता है क्या ये ज़माना ऐसा है साहब <laughs> हिम्मत सिंह जी घबराना नहीं आपके पास बहुत शक्ति है बहुत शक्ति है अंतर की हाँ शरीर की शक्ति नहीं शक्ति हमेशा आत्मा की ही बोली जाती है ब्रह्म शक्ति जैसे बोल रहे हम हुँ? हम्म? तो तो हमें मालूम हो गई है कि हम ये है हम शुद्धात्मा है और हिम्मत सिंह जी मेरा इमीजिएट नेक्स्ट रिलेशन है और इसी में से रिलेशन की दुनिया का संबंधों की दुनिया का संबंध को सही समझ में आवे तो फर्स्ट अपना खुद का एस्टेब्लिशमेंट संबंध का नहीं होता मेरे समझ में नहीं आता वहाँ तक हम दूसरों के साथ व्यवहार में रहते हैं उस संबंधों का आपको औदिश्य मालूम नहीं होगा उसकी उपयोगिता कैसी है सबको एक दूसरे के लाभ के लिए समझे न जो स्व का लाभ कर सकता है वो ही उनसे पर का लाभ होता है समझे ना ये बात है ये शुद्ध व्यवहार है तो आपने बताया कृष्ण ने अर्जुन को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराया दूसरे दफे जब व्यवहार का सब समझा बता दिया दर्शन का भगवान भगवान मानता तो था पर वह क्या कैसे जानता नहीं था व्यवहार में एक दफे कराया पहले तीन दफे पहला अपनी माता जी नहीं नहीं पालन पालक माता जशोदा माँ खुद बचपन से इतने इतने छोटे में आ कर दर्शन दिखा दिया हा? बच्चा है मुझे हैरान बहुत करता है आ, फिर से अर्जुन को व्यवहार में व्यवहार समझने की बदले तू भगवान मानता तो है सही लेकिन जानता नहीं मैं कैसा भगवान हूं तो इसीलिए व्यवहार में करवाया और उसके पश्चात जब उसको कर्म का उदय आया हकीकत में कि जब वो इतना समझाने के बाद भी ऐसा हो जावे तब वहां भी समझाई गीता पूरी ऐसे युद्ध में कोई छड़ता नहीं उधर ज्यादा इतने युद्ध में गीता आज की गीता हम जानते हैं अलग है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो गीता समझाई गीता मैना चेतन का ज्ञान ये जड़ शरीर में क्या बताया और वो चेतन दृष्टि से लेकिन वो समझ नहीं पाता था पीछे बताया बीच गीता के बीच में प्रभु जैसा आप समझाते हो वैसा वैसा आपका स्वरूप मुझे समझ में आता आ जाता है लेकिन असल में आप कौन है मेरी ये घड़ी में कि मैं मेरे सगे वालों के साथ लड़ना नहीं चाहता मेरे गुरु जी के सामने नहीं मेरे पितामह के सामने नहीं और कई कई लोग सब मेरे ही है तो मैं किसके साथ लड़ू किसको हुँ? तो अर्जुन ने बताया भगवान तू जब मानता है कि तू लड़ेगा और तुझसे मरेगा और तू उनसे मरेगा तू ये मानता है हकीकत ये नहीं है हकीकत मैंने देख मैंने देखी है मैं जानता हूं और मैं अभी भी देख रहा हूं सारा युद्ध में सब सामने सामने आ गए हैं सभी मरेले है मरेले है वो भगवान की नज़रों में लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आती तो बोलते मेरी समझ में कुछ नहीं आता काम करो मुझे अपना असल स्वरूप दिखा दो ने तो ये मेरी टू बी और नॉट टू बी डिलेमा की स्थिति आई है तो कुछ मैं नक्की कर सकू नक्की करना संसार में यही होता है साहब हाँ? व्यवहार में फाइलों का संभाल निकाल बताया फिर भी <laughs> आप कोई आपसे कुछ होने वाला नहीं करने जाएंगे तो और फंस जाएंगे छोड़ो और मैं जानता हूं ये क्या बनता है कैसा है कौन करवाता है मेरे तो पूरा सब ख्याल में है हुँ? हम्म? उनका ये अनुभव प्रमाण से हमें आज्ञा दी कि व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सकमशंशल एविडेंस मात्र वो चलाने वाली शक्ति है बिना शक्ति एक विश्व की किसी भी एक्टिविटी नहीं चलती ये वृक्ष पौधा खिलते जाते हैं वो शक्ति है व्यवस्थित की वो खुद की नहीं है मनुष्य को खुद की शक्ति हो ही सकती नहीं समझे सुपर ह्यूमन होता तो उसको होती है लेकिन वो शक्ति कैसी है कि वो करने वाली नहीं है वो तटस्थ है इम्पार्शल है नहीं समझे तो जब आप हिम्मत से के साथ तटस्थ इम्पार्शल रहेंगे तो ही आपके श्रीमती जी के साथ इम्पार्शियली उसके साथ डीलिंग कर सकेंगे लड़के के साथ भी और सभी के साथ घर में जब इम्पार्शियली सभी के साथ निर्णय सीख लिया तो बाहर सीख लेंगे तो बाहर की दुनिया तो बाहर की है क्या बताया लेकिन हमारे की अंदर की समझ से अंतर, अंतर अंदर की दुनिया है ना वो सही दुनिया है ये पांच इंद्रियों वगैरह वो तो एक खोखा है हाँ? वैसे વૈસે मुखोटा बोलते બોલતે હે ને मुखोटा महीना क्या था <laughs> नहीं समझे इतना तो समझ लेना चाहिए हुँ? हम्म? तो जो उन्होंने विश्व दर्शन दिखाया दे तब हाँ पीछे फिर भी नहीं समझा तो भगवान समझ गए कि उसको मुझे ये दिव्य दृष्टि परमात्मा की प्रकाश की दृष्टि में उसको प्रदान न करूं वहां तक वो नहीं अभी लड़ने को तैयार नहीं होगा तो प्रदान कर दी कर दी और ओ क्या हो इतनी ज्यादा समझ के बाद और इमीजिएटली दे दी अरे क्या बात है खुश हो गया नष्टो मह स्मृति लद्दा मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं खुद को ही भूल गया था मेरी स्मृति आ गई मेरी क्या क्यों आपकी श्रुति के कारण इतनी बड़ी कितनी श्रुति में ना समझाया समझाया उसके कान में श्रवण हुआ उसको श्रुति बोलते हैं लेकिन श्रवण हुआ वो सही ढंग से अपने अंदर रहे तो भी श्रुति काम करती है नहीं तो क्या करती है समझे कि नहीं तो ये बता ये शास्त्र के शब्द है लेकिन हमारे जीवन में आज कलयुग में आसानी से समझ में आ जाते हैं और इसीलिए तो सत्संग सभा होती जाती है समझे ना जैसा जैसा अनुभव मिलता है तो ये दर्शन करके तो पीछे आपका वचन वो मैं करूंगा ऐसे ही महात्मा किसी को मालूम नहीं है कि ज्ञानी पुरुष के जात के क्या करना है ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे खाली दो चीज चाहिए क्या बोलते हैं दो चीज वैसे तो लोग बोलते तो बहुत महंगी है हम कैसे दे पाएंगे लेकिन मैं समझाता हूँ वो महंगी नहीं है बिल्कुल सस्ती है ये दो चीज बताते हैं क्या परम विनय परम विनय है कि नहीं टोटल ह्यूमिलिटी समझे वो एक मांगता हूं उसकी क्या दाम है कुछ है कुछ अच्छा दूसरी तो दूसरी क्या मैं कुछ नहीं जानता ज्ञानी के पास इतना तो दिल में रखो आप अगर जानता हो और ज्ञानी आपको बता दे कि आप कौन है तो बता देंगे लेकिन जानते हो तो बर्तन तो है फुल तो डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा वो <laughs> तो गाने की व्यवस्था लेना है ना ये दो चीज मांगते हैं कितनी उसकी कीमत है बताओ हिम्मत सिंह जी <laughs> आप समझे ना यही कृष्ण का है अर्जुन का हुआ अर्जुन का था ही वो तो हम्म? संबंध होते फिर भी तो ये बना आप भी करेंगे लगा और धनुष्य था टंकार कर दिया चालू हो गया चालू हो गया कृष्ण भगवान ने आखिर तक उनके साथ रहना पड़ा क्यों कि कृष्ण भगवान वैयक्तिक पॉजिटिविटी का पक्ष के थे और सामने लड़ने वाले भीष्म पितामह नेगेटिव के नहीं थे लेकिन जो समाज में हम रहते भाई मैंने वचन दिया मुझे पालना पड़ेगा मैं उनका लूण खाया है मीठा खाया तो मैं करना ही पड़ेगा गुरुदेव भी ऐसे पिता ऐसे मैं वचन और मैं मैं सबका पितामह हूं और उसको वचन दिया उसका मेहमान रहता हूं क्या करूं मैं मेरा दिल आपके तरफ है लेकिन क्या करूं मुझे <laughs> क्या क्या हुआ है ये गीता और महाभारत में इतना बोध है आज के कलयुग के मानव के जीवन के लिए लेकिन उसका सही मर्म है इन्हें वो मर्म बताने वाला नहीं रहे आज गीता का एक एक श्लोक का मर्म जो है वो मर्म समझा वाला न रहे दादा भगवान ने कई कई ढंग से कई गीता के सभी तो श्लोक नहीं किए लेकिन सारा सार रूप कृष्ण भगवान का सारा नारायण स्वरूप बता दिया सबको आप समझे ए, तो कृष्ण को पीछे दर्शन दर्शन देना पड़ा उनको नहीं तो नहीं लड़ पाता था हुँ? हम्म? ऐसे हमें जब ये ज्ञान मिलता है वो ज्ञान बोया जाता है बीज स्वरूप से और फलित होता है मेरे अंदर फलित होता है तो हमारे अंदर काम करता है आत्मा खुद काम कुछ नहीं करता लेकिन बीच में एक एजेंसी खड़ी हो जाती है आत्मा और शरीर के बीच में वो आत्मा का पक्ष की प्रज्ञा शक्ति बोलते हैं प्रज्ञा शक्ति महीना अभी सारा हिम्मत सिंह जी का मन का बुद्धि का हिम्मत सिंह जी के शरीर का अहंकार का और मैं हिम्मत सिंह जी वो उसका कॉन्शियसनेस है ना रॉन्ग कॉन्शियसनेस वो सभी को हमें देखने वाले बता दिए उसका ज्ञान करवा दिया उसका लक बैठा दिया वो लक्ष्य चाहे कैसा भी व्यवहार हो लेकिन वो हटेगा नहीं ऐसा ऐसा होगा क्योंकि बहुत प्रेशर आते हैं जीवन के ऊपर से आता है वहाँ ऊपर से आता है खिंचाव में आते हैं क्या अरे ऐसा ऐसा घुमा के आते बहुत अर्थक्वेक होता है ना तो इंजीनियरिंग को टॉर्क बोलते हैं स्ट्रेन स्ट्रेन क्या क्या नहीं आता लेकिन ये प्रज्ञा शक्ति से आप सब ये शरीर अपना सह सकता है सहन नहीं करना पड़ता सह सकता है क्योंकि प्रज्ञा शक्ति बैठी है अंदर प्रज्ञा शक्ति के इतना अच्छा फंक्शन है कि संसार में प्रवेश नहीं करने देती अर्थात मन वचन काया के हिम्मत जी का देह उसमें प्रसन्न दाखिल नहीं करने देगी आपको और अशुद्धात्मा पक्ष छोड़ाएगी नहीं समझे ना और आखिर मोक्ष था थे, वहाँ है वहाँ तक रहेगी वो आप समझे प्रज्ञा अर्थात हिम्मत जी का हर एक मंग वाचा अंतर की वाचा बाहर वाचा और सारा पांच इंद्रियों का बाहर के विश्व का अनुभव उससे सही ढंग से समझ ले हिम्मत से जो तू तू है और मैं मैं हूं वो प्रज्ञा करवाती है प्र महीना विशेष भाव से ज्ञ महीना जाना जान, ज, ज, ज, जना देती है सब जना देती है जना जना देना वो शुद्ध आत्मा का गुण है दिखवा देना उनका गुण है हुँ? जो दिख दिख पाता है उनको ऐसी शक्ति नहीं लेकिन जानते थे जो दिख पाता है वो बोलता है कि मैं देखता हूं आंखों देखती थी बोलते मैं देखता हूं कान सुनते को मैं सुनता हूं अभी तो हिम्मत स्थिति की आंखों देखती है कान सुनती है इसीलिए दादा भगवान ये काल में जो कृष्ण भगवान ने अपनी कृपा से दिव्य दृष्टि दी थी और वापस ले ली अगर नहीं लेते तो नहीं लड़ पाता हमारे महात्मा होते मैंने ज्ञान हो गया तो व्यवहार व्यवहार कभी तो गड़बड़ हो जाती है <laughs> अब हम तो ज्ञान हो गया है नहीं तेरा व्यवहार कहां जाएगा कहां जाएगा दादा दादा भगवान तेरा व्यवहार को संभाले और तो कोई भी उन्हें हाथ में ले लिया जा तू मैं तेरा पूरा व्यवहार संभालूंगा ऐसा वसन भी साहब मुझे समझाया तब तो मुझे समझ में आया क्या <laughs> बोलो क्या करे अच्छा तो मैं खुद तेरा व्यवहार संभालूंगा लेकिन उसकी मैं उसके लिए मैं पांच आज्ञा देता हूं पांच आज्ञा तो पांच आज्ञा क्या है कि तू तेरा व्यवहार लेके आया है लेकिन वो व्यवहार ही तू है ऐसा मानता था वो ना रहा अभी तेरा नहीं रहा लेकिन हिम्मत सिंह जी जरूर रहे उसको कैसी दृष्टि से रहे तो क्या व्यवहार दृष्टि से हिम्मत सिंह जी पूरा व्यवहार है कि नहीं बोलो तो उनकी दृष्टि है कि नहीं तो आज्ञा से देनी पड़ी क्यों कि आप अपना व्यवहार भी नहीं संभाल पाएंगे मैंने ज्ञान तो दिया क्या करूं मैं मुझे आपका यही भी करना पड़ेगा लेकिन उनकी कृपा से वो संभाल सकते हैं मैं आपका शरीर तो मैं नहीं हूं आप अपना शरीर लेके अच्छे दुकान मार के आए हैं मजा करते हो सब कुछ करते हो बिगड़ता मेरे पास आते हो और ठीक होता है चले जाते हो पीछे मजा कर ले तो वापस आते हो और हम जो बोल बताते वो नहीं करते बहुत दादा भगवान तो इतना करुणा सिद्धा में रसिक भाई कहाँ गए समाधि में है पूरा पूरा समाधि में समाधि पक्की बहुत अच्छी सेवा आई उनके पास मेरी हम्म, रंजन में हम्म, हम्म। तो ये कृष्ण भगवान ने जो विराट दर्शन बताया वो ही हमें हमारे विराट पुरुष है उसका दर्शन हमें करवाया दादा भगवान ने खुद और वो खुद विराट पुरुष लेकिन ये विराट शब्द हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम शास्त्र की भाषा में समझे कि बड़ा आकार है ये क्या इतना मुख है ऐसा वगैरह ऐसा नहीं है विराट का अर्थ ये है कि शरीर होते हुए भी और शरीर इतना गुण वाला है कितनी नहीं तो मनुष्य का शरीर गुण वाला होना बहुत मुश्किल है ये तो कृष्ण भगवान नारायण स्वरूप है ऐसे ऐसे लोगों का होता है समझे ना गुण वाला है तो ऐसे है उसने उसका विरा, विराट स्वरूप हमें है वो दिखा दिया इतनी बड़ी कृपा की उन्होंने इतनी करुणा से हम्म, करुणा से इसीलिए हमें रमीन साहब ने बताया तो हमें खुश हो गए करुणा सागर तो सब बोलते हैं लेकिन करुणा का अवतार नहीं होता अवतार इसी को अवतारी पुरुष बोलते हैं हम शरीर से जन्म पाते उसको अवतारी पुरुष समझते हैं कि कृष्ण भगवान का राम का बोलते समझे नहीं उनके अंदर जो उनकी स्थिति है जन्म से ही उसको अवतार बोलते हैं और हमारे लिए महात्माओं के लिए क्या कि हम जो पुण्य थोड़ा सा अच्छा पुण्य बचा था व्यापार करते करते करते कुछ बच गया था दिल में तो उसके कारण निमित्त बना दादा बोलते आपका पुण्य और मेरा निमित्त ऐसा नहीं होता आपको पुण्य पुण्य का निमित्त बना और शरीर शरीर का निमित्त अपने अंदर से ऐसे सुपर ह्यूमैनिटी से न होता तो ये न बनता और सुपर ह्यूमैनिटी कैसी उसके पश्चात तो अनुभव विशाल सब कुछ ये विराट पुरुष है विराट पुरुष महीना अहंकार शून्य हमेरी भगवान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति ब्रह्म की अनुभूति और उसका लक्ष्य लक्ष्य महीना फिट हो जाना ना एक दफा लक्ष्य हो फिट हो गया हो गया ना लक्ष्य और प्रतीति श्रद्धा बैठ गई श्रद्धा अपना स्थान से अभी हलेगी नहीं संसार तो आपको बहुत हल्लाने वाले आएगा नहीं हलेगी नहीं कि क्यों क्यों लक्ष्य के साथ है क्या बताया लक्ष्य के साथ है और लक्ष्य कैसा है तो ज्ञान के ज्ञान के लक्ष्य वाला ज्ञान का लक्ष्य बैठा है इसीलिए दिखाने का चालू हो गया दिखने का वो दिखते दिखते दिखते ज्ञान खुला होता जाता है मेरा ये विराट स्वरूप है अब मेरा हाँ तो मेरा अहंकार तो दादा भगवान ने खुद ने ले लिया क्यों कि दादा भगवान को उनको स्पर्श करके निकल जाता है वो कुछ ग्रहण नहीं कहते वो कुछ त्याग नहीं करते समझ अच्छा अभी आए अच्छा अच्छा हम्म वो ग्रहण और त्याग दोनों से मुक्त हो गए हैं ऐसे दादा भगवान और हमें यही बनाया लेकिन हमारा व्यवहार बाकी है इसीलिए पांच आज्ञा व्यवहार दृष्टि से मैं हिम्मत से जी हूं और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं ये निश्चय दृष्टि अविनाशी है शाश्वत है है कि नहीं और हिम्मत सिंह की व्यवहार दृष्टि कैसी है विनाशी है वो तो है ही नहीं लेकिन व्यवहार दृष्टि से हिम्मत सिंह हिम्मत सिंह जी को पूरा व्यवहार में व्यवहार स्वरूप से रहना पड़ेगा वहां निश्चय नहीं कर पाते आप निश्चय तो मिल गया इसीलिए अर्जुन ने बताया नष्टो मोह बोलो स्मृति लब्धा क्यों के अर्जुन और विश्व विश्व सारा विश्व अभी लड़ने को बैठा है कितना बड़ा सैन्य है तो विस्मृत हो गया इसलिए उसको स्मृति हो गई जगत विस्मृत होता नहीं और हमें हमारी असल स्मृति प्राप्त नहीं होती जो हम असल में कौन है समझे ये है आपका आपका दूसरा क्या बताया कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को महाकाली का साक्षात कराया देखिए इस साक्षात्कार बोलते हैं दो प्रकार के होते हैं क्या साक्षात्कार उसको अनुभव समझते हैं लेकिन एक व्यवहार की ऊंची दशा वाला एक होता है वो एक अनुभव होता है क्या बताया वो संत पुरुष हो दिल वाले संत पुरुष हो तो उसके हो सकता है लेकिन वो व्यवहार के पक्ष में है व्यवहार में ना रिलेटिव पक्ष में है तो साक्षात्कार रिलेटिव पक्ष में होता है जरूर होता है समझे उसको क्या बोलते हैं वो योगी लोग सब वगैरह के शब्द ब्रह्म बोलते हैं ब्रह्म साक्षात्कार ऐसे लेकिन वो ब्रह्म दरअसल ब्रह्म नहीं है ऊंची ऊंची भूमिका है अंदर की उसका ही है और ऊंची भूमिका इसको समानता करवा देता है तो उसमें वो लोग बोलते हैं ना कि वो शक्ति शक्तिपात बोलते हैं ना शक्तिपात ऐसा शक्तिपात में एक से शक्ति दूसरे जाति ऐसा नहीं है ऐसा नहीं वो कृपा मार्ग है पूरा लेकिन व्यवहार में शरीर के नाते जो विद्या सब होती है इसमें ये सब होता ही है हमेशा भगवान हाजिर है तो व्यवहार में सभी कुछ हो सकता है अगर भगवान हाजिर नहीं तो व्यवहार ही नहीं रहता नहीं समझे बोलो नहीं साहब हम्म, बस समझ गए भगवान जानने वाले हैं वो व्यवहार हमें मुझसे जन, जाना जाता है कि हिम्मत सीजी और उनका पूरा व्यवहार उस शरीर का तभी वो बाहर का व्यवहार को सही ढंग से हम समझ पाएंगे और दूसरों का व्यवहार हम कैसा भी हो उसका अशुभ हो तो भी हम उसको स्वीकार कर पाएंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे नहीं तो मेरी तेरी होने ही वाली है वो तो किरीट जी होना है इसी इतनी बात है जी ने एक दफ़े हमें टेक्सास ईस्टर्न गए थे मेरे ख्याल से 20 साल ऊपर हो गए वो तो एक हमारे रमेश भाई करके महात्मा थे उनके वहाँ मिले थे मुझे हमारे भद्रंग गांव के ही थे वो रमेश भाई हाँ तो मिले थे पीछे मुझे बड़ा साइंटिस्ट है वो अमेरिका का किरीट मेहता बहुत पढ़ा लिखा है तो इतना मैं प्रेस करता हूँ पर उछलता नहीं ઉછળતા नहीं तो क्या है जो हाँ ये बरोबर है लेकिन ये दादा भगवान चौदह लोग के नाथ बोलते हैं क्या मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कैसा है ये शरीर है तो ऐसा यूनिवर्स का नाथ कैसा हो तो उसमें इतना सत्संग निकला था मेरा एक घंटे के ज्यादा है मिता भी थी कहाँ गई मिता वो थी लेकिन उसने मजा आ गया अभी उसी समय जो निकला मेरी वाणी वही मेरे मुझे बोले कि अभी निकालो तो कैसे निकल सकते साहब रिकॉर्ड बच गई पीछे वही बोल नहीं लेकिन बच गई रिकॉर्ड अनेक प्रकारों से वो निकलती रहती है क्यों के उकलती जाती रिकॉर्ड है हमारी हाँ, सीढ़ी ऐसे मिनट की ऐसी होती है एमपी जो ज्यादा करती है लेकिन इनफाइनेट तो नहीं कर पाते ना एमपी को <laughs> और ये तो है आखिर लाइफ लॉन्ग की है ये सीडी कैसी है और खुद की बनाई हुई और खुद को ही सुननी पड़े अरे भाई ये तो तकलीफ हो गई हमारी हाँ, सीडी हमसे सुनने क्या तकलीफ हो गई तो ये बोलती है कि मैं मुझे सुनी नहीं जाती मेरी सीडी मुझे सुनी नहीं जाती ए ब्रिज ऐसे बोलते क्या करूं हा? एक एक हमने लगता है महात्माओं को जो उसकी दृष्टि में फिट हो गया है ना प्रगड़ा बड़ी अच्छी है इसीलिए सत्संग में मजा आती है और शरीर की भिन्नता न होती तो सत्संग की विविधता कैसे बार आती और अनुभव की विविधता कैसे बार आती जो एक ही प्रकार का अनुभव है सभी शरीर में इसको अनुभव बोलते हैं एक गांव का है अनपढ़ है अनुभव हो जाता है तो दादा भगवान हम 73 में निकले थे तो आबू रोड रात को दस ग्यारह बजे गए थे मोटे अंबाजी तब कहीं प्रसंग से खुला दर्शन हुआ हुआ दादा वो ले लो कोई बात नहीं <laughs> हुआ पीछे आए नीचे रात निकाल दी और सुबह जाते जाते बस में गए थे बस ली थी यात्रा निकाली थी तो बस चाह पीना वो, वो आबू रोड के स्टेशन पे है ना चौतरा जानवर बड़ा अच्छा हो बैठे दादा और नटू काका थे वो तो वो होते दादा और खिलते हैं <laughs> तो ऐसा बना और एक गांव का आता ना वो फेंटे वाला अपना राजस्थानी बैठा था दूर हाँ तो दादा सब बैठे चाह पीते पीते उसको देखे रखते थे उनकी दृष्टि से उसको दीक्षा मिलती थी दोनों समझो तो दादा लड्डू का बोले ये दादा भगवान चाह पीते अरे उसके साथ कैसे देख देखते थे दादा भगवान ऐसा नहीं किसी के पास नजर रखे चलते <laughs> तो पीछे गया तो पीछे बस चाह पी लेना પછી उसको बोला उसको बुलाओ बुलाओ हमने उसको नज़ीक बुलाया और कैसा है गांव की भाषा में पूछा तो हाँ। देख तू उनकी भाषा में बताया कि भगवान है और ये तेरा शरीर तेरे अंदर भगवान है शरीर तो उसकी भाषा हम समझ गया खुश हुआ नमन किया उन्होंने तो दृष्टि भी हो गई पीछे स्पर्श दीक्षा भी हुई और चरण दीक्षा सब कुछ हो गया पूरा एक कितना में हो गया बोलो एक ज्ञानी पुरुष की सत्ता है ये जो और वो सत्ता का वापर नहीं होता उन्हें सहज बनता जाता है ये भगवान का स्वरूप है तो पीछे नटू का तो बहुत इंक्विजिटिव बहुत था जाने में ये कैसे हो गया हम इतने साथ दादा साथ रहते हैं ऐसे तो इतने में और ये <laughs> पर रवारी था ऐसा बैठा था तो पीछे हाँ भाई नटू का गम्मत करोगे उसके बाद अरे तू दादा क्या किया कुछ पूरा हो गया पूरा क्या किया समझा हमें इतना हैरान होते हैं समझने में <laughs> दादा क्या क्या क्या तुम तो क्या समझा कि मैं मोइला क्या बताया उन्हें मोइला मोइला मैं अंदर वाला भगवान और एक खोखा का ये बात बोले वो खोखा हाँ? मैं हम साथ दोनों हाँ तेरे को मालूम होगा पक्का बिल्कुल पक्का रहेगा अभी मर जाओ तो भी रहे उससे समय भी रहेगा क्या रहेगा महिला और ए अलग है क्या ए, ए हकीकत है हाँ बनी हुई अभी मैं शब्द वेद नहीं कह पाता आपको जो बना हो समझे रहे हम तीस जन गए थे यात्रा में 973 में तब ये बात बनी थी समय सीकर जी कलू भाई को हुआ कि जैन लोग बोलते हैं समझ से कि जी बहुत पवित्र है वो तो हमें तो तीर्थन के क्या मोक्ष का कुछ मालूम नहीं था <laughs> समझ से कि रहा था कि बहुत पवित्र है तो जाना चाहिए दादा को बताया दादा एक मानसून में कंस्ट्रक्शन बंद होता है ना तो दादा अच्छा करो जाओ जब पीछे नक्शा निकाला कनुबेन किसको तपास करके करके करके नक्शा लगा यहाँ से निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे ऐसा आ जाएंगे तो दादा भगवान बताया देखो कनुबेन ने नक्शा बताया इसी ढंग से हम आए यहां तक आगा कहा नहीं हुआ वो फोर्टी डेज लगे थे फोर्टी डेज और सेवेंटी थ्री में मैक्सिमम रेन और सेवेंटी फोर में इमरजेंसी आई पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी इतना बरसात इसका तो बहुत बोलन है अभी तो क्या करूं इतना बड़ा शास्त्र हो जाए ऐसा है दादा की हाजिरी का प्रभाव एक एक लोग चमत्कारी मानते रहे पर चमत्कार नहीं होता दादा भगवान बोलता है कोई ये विश्व में चमत्कार नहीं करता चमत्कार कुछ है नहीं है कम जानने वालों के लिए जो ज्यादा जानने वाला है उसकी करामत है और कुछ नहीं है करामत बोल रहा है उन्होंने जब वो तो होता ही है संसार में भी होता है नहीं समझे <laughs> तो और जो जादूगरी करते हैं वो भी ट्रिक है साइंस है उसके पीछे विज्ञान है हमारे के लाल ने बताया एक दफ़े हमें मिले थे दो दफ़े मिले थे बहुत बात हुई उनसे तो एक दफ़े आंध्र में गए थे और आंध्र में अपने साईं बाबा थे ना उसका बहुत बड़ा अपना सत्य साईं बाबू बोलते हैं ना बेंगलोर के फुटपत्थी बोलते हैं उनका बहुत बड़ा उनका तो एक दफ़े उससे व्यवहार में बोलने का ये करते हैं बरोबर है हरकत नहीं है लेकिन वो विज्ञान है उसके पीछे आई ले ही ले वपुति एक ऐसा मनुष्य जन्म नहीं पाया कि खुद कर सकता है कोई भी ये विज्ञान है जरूर और उसके पीछे है कुछ सब कुछ इसलिए मैं ओपनली बोला तो वो बात गई उन लोगों के फॉलोअर्स में तो उसने खानगी में उसके पाछे लगे थे केलाल के पीछे जैन पक्का जैन है वो हम्म, तो अहमदाबाद में है अहमदाबाद में अभी उसका लड़का महेंद्र समझे तो छाना माना तो पैसा लेके गए थे वो साउथ इंडिया में माल लेते नहीं वैसे फिल्म में देखते नहीं आप <laughs> उसका ये यही है सब कुछ ऐसा लेके एक ग्रुप गया देखो मुंह बंद रखो नहीं तो <laughs> बोले कोई बात नहीं तुम मार दा, मार डालो लेकिन मैं बंद रखूंगा मैं, मैं उसको भी सादर करते हैं उसका सवाल नहीं है हम नहीं बोलेंगे ठीक है जो बात सही है वैसे तो बोलनी चाहिए ना सभी जगह अपना व्यवहार में ऐसा होता है जब बड़े पुरुष कोई मिले तो उसके हो गए अब इसी ढंग से समझते हैं वो मानव है लोही और मांस वाले हैं अपने सर के ऐसा ऋषभ देव दादा ने सभी लोगों को बताया बस नहीं वो अग्निदेव है वो वायुदेव है वा, वा, वा, अपना ईशान देव को बोलते हैं ना बारिश वाले और क्या रूठे हैं मेरे पर तो हम नजदीक नहीं जाएंगे तो समझा ऐसा कुछ नहीं है उसके पीछे सब ये समझ नहीं है हुँ? हम्म? आग लगी <laughs> तो हमने बताया जयद्र कल्याणी को सदरूबियन को કે એક કામ કરો ને એ ऋषभ दादा बनाओ ने कैसा बनेगा मुझे मालूम नहीं करो एक प्रयत्न बनाया उन्होंने सुनील सुनील भाई ऋषभ दादा पर नित्य नाटिका ये आप घर में रखना मजा आएगी हुँ? हम्म? मजा आएगी तो ये परम हाउस रामकृष्ण परम परमहंस ये योग मार्ग में उच्च योगी थे उच्च योगी थे लेकिन आत्मयोग उन्हें प्राप्त नहीं था लेकिन वो उच्च प्रकार के संत थे और दिल से छोटापन वाले थे बिल्कुल छोटापन वाले अपनी शारदा देवी वो शारदा माँ करते थे उनकी धर्मपत्नी समझी और उसमें इस, कोई भी के एक ऐसा करो बहुत ऐसे संत बहुत कम होते हैं होते हैं ऐसा नहीं लेकिन होता है मध्यकाल में ज़्यादा थे मध्य उनके समय वो समय में आज के काल में थोड़ा ऐसा हो गया होता है सच्चे लेकिन ज़्यादा संख्या अलग दूसरे प्रकार की होती है वो तो होना व्यवहार है तो व्यवहार चल रहा ही कहीं बाजार बहुत बड़ा है कितना बड़ा मेला भरा है छोटा है मेला हाँ तो मेला में सब कुछ चलता है जादूगरी चलती यहाँ से ले ले ले लो एक का दो करो सब कुछ मेला में चलता है चलता है साहब आपको सहन नहीं होता ना अरे ये कैसे क्या करता है लोग हाँ तो अच्छे संत थे रामकृष्ण परमहंस और कहीं प्रदेश के लोगों ने सही लोगों ने उनसे बहुत चर्चा की उसका पुस्तक निकला है रामकृष्ण परमहंस का अनुभव प्रमाण बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा है हमें मिला था तो विवेकानंद को मिले अरे आया था अभी ये प्रयत्न ये मैं बात करता हूँ हमारे आपका पुत्र है ना वो दादा भगवान के पहले गए ना वो कॉन्वेंट स्कूल वाले तो आगे आ जाओ समझाओ चलो चलो चलो आपको शर्म आती है क्या नहीं नहीं तो बस सीधे सन्मुख हो जाओ तो उन लोगों को आपसे सम्मुख होने का कुछ समझ में आवे <laughs> सन्मुख महीना भगवान को भगवान के सन्मुख रहना शरीर होते हुए भी अंतर से सन्मुख शब्द बहुत बड़ा है वो दृष्टि से है और निश्चय दृष्टि समझे ना ये बात है व्यवहार है व्यवहार दृष्टि है फिर भी सन्मुखता बड़ी अगत्य की बाबत है सन्मुखता हाँ, चलो आत्मसन्मुख हम्म। समझाओ साहब नरेंद्र <laughs> अरे ऑन है जय हाँ, સચિદાન पड़गा पड़ेगा इतना तो रखो आप जय हाँ, तो सच्चिदानंद हाँ। पहली दफा जब जब दादाजी के पास आया तब ऐसे ही कितनी उम्र थी अभी मुझे पूछना ना पड़े ऐसा पूरा बताओ no fill in the gaps दादाजी कुछ <laughs> ऐसा हुआ था ऐसे ही बैठे तो देखा कि लोग पूछते हैं दादाजी को समाधान मिल जाता था दादाजी से और खुश खुश होकर चले जाते थे मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि कैसे जाके पूछे एक तो गुजराती आता नहीं था और सब लोग गुजराती में बात करते थे तो एक तीसरे चौथे दिन जाके बैठ ही गया सामने क्या कर दिया और मुझसे दादाजी का कुछ पूछना है, है। मुझसे तो, अलग है। बैठ मैंने मेरी जो पजल थी वो मैंने पूछा दादाजी को कि मैं जब अपने आप को ये हम बम्बई में रहते थे जू बीच के पास तो कहा जब मैं अपने आप को फैमिली के साथ देखता हूँ जो बच्चे लेके वो पानी में चलते हैं ना ऐसा करके फैमिली बोला मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरे लिए नहीं है मुझे ये झंझट नहीं चाहिए मुझे दादाजी ने बताया ये सब कमजोरी है <laughs> कमजोरी है मैंने कहा दादाजी ऐसा नहीं लगता अगर मैं तय करूँ तो उसको मैं निभा लूंगा लेकिन वो मेरे लिए नहीं है ऐसा मुझे लगता है बोझा लगता है ऐसा वो बोझा लगता है ना <laughs> सती दिया है, है? अरे पधारिए પધારીએ અરે એમને અમને પર બેસવા દો આ જગ્યા કરો બધા પધારીએ હમ પધારીએ આપણે પાઠ પર બેસાય ને आज तबीयत थोड़ी नरम थी सुबह में तो बात तो के दोपहर को तो पर फिर भी जब सत्संग की बात आती है तो शरीर एकदम ताजा हो जाता है <laughs> चला तो आ गए हम नहीं मैं अगर अभी तो दो दिन हूँ और सोमवार के दिन भी यहाँ हूँ तब मुझे ये तो सब कल रविवार को दोपहर से सब जाने अच्छा तो कल कल मैं जरूर आज और कल मैं प्रयत्न करता हूँ और वो दोपहर को उनके आपके उसके पहला हम्म, उस एक एक घंटा निकालेंगे हम सर अच्छा, कोशिश करेंगे वो मैं मेरे फायदे के निकालने वाला हूँ माँ जी साहब के हाँ मैं ऐसा समझता हूँ मैं समझता हूँ महावीर भगवान ऐसे ही थे साढ़ा बारह साल में उन्होंने वर्धमान का फायदा नहीं किया खुद का कर लिया तो खुद का फायदा हो तो वर्मान का फायदा हुआ कि नहीं तो यही बात है सीधी हमारे सर आज के व्यवहार में हम्म, देखो संभाल हम्म। अच्छा बैठिए ठीक से हाँ ठीक ढंग से तो ये बात चल रही थी रामकृष्ण परम और विवेकानंद उनका उनको अनुभव सुनो उनका खुद का सर्वप्रथम दादा भगवान के गए फिर दादाजी ने बताया ध्यान से सुनो फिर दादाजी ने बताया कि ये सब बातें छोड़ो तुम्हारा नाम क्या है दादाजी ने बताया तुम्हारा नाम क्या है जयंती काका जयंती आपने आपने ही बोला है थोड़ा यहाँ बैठ जाएंगे आओ हाँ, चलो बोलो बोला तुम्हारा नाम क्या है मैंने कहा दादाजी दीपक मेरा नाम है हकीकत में कौन है हकीकत में कौन है ऐसा पूछा दीपक तो तेरा नाम हकीकत में कौन हूँ अभी ऐसा था कि हम जहाँ रहते थे हमारे पड़ोस वाले जो आंटी अंकल थे उनके घर पर बच्चे नहीं थे तो वे साधु सन्यासी का संपर्क अच्छा रखते थे सत्संग में जाते थे तो एक दफ़ा और वे हर रविवार को सत्संग रखते थे एक घंटे का नौ से दस और उसमें अलग अलग शास्त्र लेते थे तो एक बार उन्होंने विवेकानंद जी का लिया था और विवेकानंद जी का परिचय बताते हुए कहा कि वे जब रामकृष्ण परमहंस जी से मिले तब उन्होंने उनको नरेंद्र जी ने नरेंद्र को या ने उनको पूछा बच्चा तुम तुम कहाँ थे अब तक कहाँ थे कब की राह देख रहा हूँ मैं तुम्हारी <laughs> बोले तुम्हारा नाम क्या है उन्होंने कहा कि मेरा नाम नरेंद्र है हकीकत में कौन है बोले मैं ब्रह्म हूँ लेकिन जानता नहीं हूँ तो नरेंद्र जवाब दिया <laughs> तो दादा जी ने दादा भगवान ने जब मुझे पूछा कि हकीकत में कौन है तो मैंने वो जोड़ दिया कि दादाजी मैं ब्रह्म हूँ लेकिन जानता नहीं, नहीं। <laughs> तो दादाजी ने बताया जानना है तुम्हें हाँ। मैंने कहा हाँ जानना है खेची भाई इनका नाम लिख लो मैं तो डर गया बोला अब कहा नाम लिख दिया अब बोला कि दो दिन के बाद आना ऐसा किया <laughs> अच्छा चलो भाई हाँ। ये जगह चलेगी उसके लिए नहीं नहीं बराबर है अच्छा। आपकी जगह पर बैठे ना अच्छा तो ये निरेंद्र और विवेकानंद वो दोनों का एक कर्म के हिसाब से जो साइंटिफिक सकमसेंशियल एविडेंस बोलते हैं यही भाव में वो उनका मिलाप हो गया जैसे नरेंद्र अपने विवेकानंद जी को उसमें उसके साथ थी ना वो जैसे अरविंद घोष को माता जी का हुआ ये साइंटिफिक सर्कमशंसल एविडेंस है कोई क्रिया से नहीं होता आप समझे इसी ढंग से हमारे सारा जीवन में जो कुछ बनता है वो खुद की क्रिया से नहीं बनता उसके लिए कोई यंत्र है यंत्र सर की व्यवस्था है सारा विश्व के लिए और सारा ब्रह्मांड के लिए यूनिवर्स के लिए लेकिन हम मानव विश्व में है मध्य लोक में है इसी कारण हम मनुष्य का सबसे ऊंचा प्रकार है सभी तरह से कर्म की बाबत में उच्च प्रकार है मनुष्य का देवों का भी नहीं तो नारकी का कहां से होगा और सब तो देख ले सब आजू बाजू जीव सृष्टि इसीलिए उन्होंने ये सारा संचालक शक्ति होनी है संचालक बिना ऑपरेटर संचालन करने वाली सारा विश्व को कौन सा विश्व तो मनुष्य विश्व मानव विश्व तो आज तो सात कितना कर, करोड़ है बस्ती सात सौ सात सौ ऊपर जो हो तो सभी को हरेक को ओ चलाने वाली हरेक महीना व्यक्ति को क्या बताया व्यक्ति को चलाने वाली ऐसी समष्टि शक्ति होनी है व्यक्ति को कैसे चलाती है व्यक्ति के मन के द्वारा उस सारा शरीर को सब मनुष्य का शरीर को चलाती है अंदर से या बाहर से दोनों से बोले तभी ये मनुष्य जी पाता है नहीं तो नहीं जी पाएगा लेकिन जानता नहीं इसीलिए बोलता है खुद हम ऐसे संयम तब करते मैं करता हूं नहीं ये शक्ति से होता है उदय होता है कर्म का उदय आता है उदय में उसका उदय में परिणाम है तो पीछे आता है तब क्रिया का क्रिया से नहीं बनता तब तब क्रिया से नहीं बनता तब स्वभाव क्रिया से बनता है अब समझे हाँ और क्रिया पुद्गल क्रिया होती है पुद्गल अर्थात हम जड़ के हिंदू में धर्म में समझते हैं और जैन दर्शन में पुद्गल बोलते हैं दोनों उसका पर्याय एक ही है लेकिन जुदी ढंग से समझना है जड़ बोले जड़ समझते हो तो वो पुद्गल स्वरूप नहीं होता और जो पुद्गल है उसमें जीव लागू होता है जीव अन्यथा पुद्गल नहीं बोला जाता वो टेक्निकल वर्ड है शास्त्र भाषा का शब्द है समझे पुद्गल वो दो शब्द का बना हुआ शब्द है शरीर के लिए पूरन गलन पूरन और गलन पूरन मीन्स फीलिंग गलन मीन्स एम्पटिंग पूरन मीन्स चार्ज हो चार्ज हुआ होना गलन मीन्स डिस्चार्ज होना बिना चार्ज हुआ गलन नहीं होता ये शरीर का स्वभाव है समझे तो आगे जो चार्ज हो गया था मन के स्तर पर और उसी कारण वाणी और सारा ये द्रव्य शरीर आया वो चार्ज हुआ तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्वरूप से है वो और उसको खाली होने के लिए उन्हें स्थूलता में आना पड़ता है इसीलिए जन्म पाना पड़ता है और जन्म पाने के लिए उनके लिए व्यवस्था होनी है वही व्यवस्थित शक्ति की है और उनके संलग्न होनी है कि उनके माता पिता जन्म देने वाले उनके हाजिर होनी जरूर है नहीं समझे हाँ लड़के को भी शादी करने की इच्छा है लड़की की भी है सभी लड़कियां जानते हैं कि शादी तो होनी होगी है लेकिन लड़का मेरे के आगे आता है तभी मेरी शादी होगी रे मेरे पीछे तो आएगा नहीं <laughs> सब लोग जानते हैं एक महीना लेट आई तो ओ, मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगे अरे क्या बोलती है ये सारा व्यवहार है हम समझते हैं इतना पूरा विज्ञान है उसमें क्या है विज्ञान है और विज्ञान हमेशा हकीकत होता है विज्ञान कल्पना से नहीं होता मनुष्य हम है वो विज्ञान से है यही विज्ञान मानव जीवन का हमें समझना है ये दादा भगवान ने ये काल में 24 तीर्थंकर भगवंतों का बेगा स्वरूप के कारण वो उनका ये गृहस्थ वेश में सादे वेश में इतनी शक्ति थी लेकिन शक्ति का उपयोग नहीं था दावर नहीं था वो शक्ति करुणा और कृपा की थी और कुछ नहीं थी समझे हाँ तो ये महाकाली का साक्षात्कार बताया ना वो इस कारण कि महाकाली तो देवी है क्या वो देवी का स्वरूप है और काली शब्द उसका अर्थ क्या है कि मनुष्य जीवन की सारी कालीमा को उसको हैरान करने से उसको दूर करती है वो उसकी शक्ति है वो देवी की इसलिए महाकाली का पूजन भी बहुत करते हैं कलकत्ता में तो उसका बहुत पूजा दुर्गा के स्वरूप में हुँ? हम्म, तो ये है ये बात वो रिलेटिव पक्ष में है रिलेटिव पक्ष और रियल पक्ष दो ही पक्ष है मोक्ष मार्ग में सारा जीवन में और कुछ पुण्य उपार्जन करना हो कैसा भी कोई ऐसा नहीं बोलता कि हम पाप का उपार्जन करते हैं कोई सुना आपने कोई ने कोई ने सुना और सारा हमारा जैन समाज हमारे आचार्य साधु साध्वी जी साध्वी जी जो कितना कष्ट उठाते हैं इसीलिए वो खुद के लिए उठाते हैं दूसरों के लिए नहीं खुद के कल्याण होनी ना हाँ कन्या हुई नहीं तहां तक कल्याण भावना से हम दूसरे के साथ नहीं नहीं जी पाएंगे तो कल्याण हो तो भावना है तो क्रिया नहीं है आप समझे भावना है और भावना और भाव उसका हक तो हर एक मनुष्य को है उसका प्राइम हक है हुँ? हम्म? तो इसी ढंग से ये अपने हिंदू शास्त्र में सबको नाद ब्रह्म बोलते हैं योगी लोग और नीचे के कक्ष में शब्द ब्रह्म बोल देते हैं ऐसी है लेकिन वो बड़े पुरुष की उसको शक्ति मिलती है कृपा से कृपा से मिलती है क्रिया नहीं है शक्ति मिलने में शक्ति खुद क्रिया क्रियात्मक है लेकिन उसे क्रिया नहीं मिलती समझे कि नहीं तो मनुष्य ये सारा शरीर क्रियाकारी क्यों है कि शक्ति के कारण कौन सी शक्ति तो हमें पूरे अंदर शक्तियां फीड हो गए थे कहाँ फिर हो गए थे तो कि ये विराट कंप्यूटर सर की सारी व्यवस्था है सारा विश्व को चलाने वाली उसमें हम फिट हो गए थे सभी फिट हुए हैं और उसके साथ सभी एक दूसरे के साथ जुटे हुए हैं इतने कॉम्प्लेक्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है और दरेक को मेरे को एक मेन केबल है वो शक्ति से जुड़ा है वो देखा नहीं जाता उसका फोटो निकलता कुछ नहीं केबल है आपका केबल आपको चलाता है और अंदर जाके इतनी उसकी ब्रांचेज हो जीता है जो जग ये मेडिकल साइंस में बोलते हैं कि इतनी इतनी वेन है तो ये बाल से भी छोटी है ऐसी कई कई प्रकार का शरीर यहां से चलाना ऐसी वो शक्ति सभी में शक्ति का संचालन होता है तो वहां सारे अपने खुद के केबल निकल जाते हैं और ये केबल हर एक का अलग है कोई किसी का केबल में और किसी के में उसको हैक भी नहीं करता उसका चुराता भी नहीं उसमें इंटरफेयर भी नहीं कर पाता बहुत मज़ा की बात है समझ में जीवन में अगर समझ समझ ले तो कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जो जिसको बनता है वो उनका उदय कर्म से ही होता है स्वयं का समझे ना ये बात है और जितनी जिसकी हृदय की आराधना इतना ही उसका उसके दूसरे मनुष्य को उतना उससे लाभ मिलना सामने वाले को हृदय से जीता नहीं है फिर भी उसको लगता जरूर होगा अच्छा है लेकिन उसका मत्था मानने नहीं देगा उसको ये आज कलयुग का सब हमारे मत्थे है सब हम्म? हृदय दृष्ट कितना अंतर है उसमें हम्म? सभी मोट बड़े पुरुष तीर्थंकर भगवंत बड़े नारायण स्वरूप सभी पुरुष ही समझाते हैं हुँ? हम्म? लेकिन आज का काल में धर्म कहीं कहीं प्रकार से है और व्यवहार में कहीं कहीं प्रकार से समझाया जाता है उसमें सही समझ न मिले वहां तक हम तो ढूंढना तो पड़ेगा ही हुँ? हम्म? कोई जान जानबूझ के तो खड्डे में नहीं पड़ेगा ढूंढना है ढूंढते ढूंढते चलते क्या ढूंढते हैं कि मैं मेरा घर से कहाँ निकल गया हूँ मेरा घर ढूंढ रहा हूँ निजी घर घर समझे अपना घर को क्या बोलते हिंदी में गुरु ऐसा तो ये घर नहीं है और उसमें हम महसूस है खुद का लेकिन यहाँ खुद का घर है जो अविनाशी कायम का परपेचुअल है ये ढूंढता है इस जीवन के सभी में कहीं के आज के व्यवहार इतनी उन्नति हुई सब कुछ हुआ व्यवहार में हम देख सकते हैं जो राजा महाराजों को जो सुख भोगना है वो सामान्य मनुष्य भोगता है एक बेघर भिखारी है दूसरो भिखारी को फोन करता है हुँ? हम्म? आज ज्यादा गराकी नहीं हुई <laughs> अरे आज तेरे का कैसा है <laughs> ये होता है बनता है देखो ना <laughs> चोर चोर को फोन करके पूछ लेता है इतनी तो आज ये पुद्गल में इतनी आ जाइए तो मनुष्य में आत्मा की अन्न शक्ति है और अन्न शक्ति है उसके कारण ये व्यवहार में जीवन के मनुष्य के व्यवहारों में सभी में और सारा विश्व में ये शक्ति कहीं कई प्रकार से खुली हो सकती है जो आज हुई है अति सूक्ष्म लेकिन पुद्गल इतना सूक्ष्म है तो आज का ये विज्ञान पूरा है वो सूक्ष्म को नहीं पहुंच पाएगा हुँ? हम्म? उनको पुद्गल कार्मण वर्गणा बोलते हैं कार्मण मन्या जिसके कारण कर्म कर्मकृत शरीर बन सके वो शरीर बनाने वाली आप समझो ईट पत्थर रेती सब कुछ है ना ऐसी वो कुदरती रचना है कार्बन रंगना बोलते नहीं तो का, का, कार्बन वाला शरीर नहीं बनेगा और वो बहुत सूक्ष्म स्वरूप से है वो मन के स्तर पर है इसीलिए सारा विश्व में सभी लोग जानते हैं कि ये मन बहुत गहरी चीज है उसको मन को समझने में कितनी कोशिश करते हैं और मन तो बोलता है मैं सीधा साधा हूं आपका ही हूं और आपके लिए हूं क्या इतना घबराते हो लेकिन एक गहरी बात आपको ऐसा कैसे आसान से बोल लेते हो हाँ? क्योंकि इक्यावन साल से ये मन हमारे मास्टर दादा भगवान से जो उनसे हमें मुक्ति दिलाई और मन हमारे जाने पड़े में आ गया हमारे देखने पड़े में आ गया पक्षीदा जो जाना जाता है वो मन है वो जानने वाले हम है उसको मन पर्यज्ञान की शुरुआत बोलते हैं उसको मन पर्यज्ञान जो जैन शास्त्र में जैन दर्शन में सबसे ऊंचा बताया केवल ज्ञान के नीचे मन पर्यज्ञान व्यक्त होता नहीं और केवल ज्ञान के पर्याय और उनकी सारी सर्जनात्मक शक्ति अंदर में होती नहीं वो सर्जन शक्ति चालू हो जाती है और हमेशा शरीर ही शरीर को बनाता है आत्मा की शरीर को नहीं बनाता लेकिन आत्मा की हाजिरी के बिना शरीर नहीं बिनता और ये आत्मा स्वरूप हमारा हा? उसका ज्ञान स्वस्वरूप का ज्ञान वो शरीर पर है जानते हैं लेकिन जानते नहीं कि पर है और हमें हमेरे उसके अधीन कर देता है वो भी ख्याल नहीं है तो पराधीन कैसे है वो तो कहने मैं तो खुद के स्वाधीन हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं मैं ही सुख सु करता हूं वह करता हूं समझो है ना हम जानते हैं शब्द हम्म? तो ये रामकृष्ण पर्स का आपका प्रश्न हो गया वो है एक रिलेटिव अनुभव होता है और दूसरा रियल अनुभव होता है ये दो प्रकार का अनुभव तो महात्माओं को जिसको दृष्टि प्राप्त है दिव्य दृष्टि प्राप्त है और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वो दिव्य दृष्टि खुली होती है अन्यथा नहीं और वो प्रज्ञा के प्रकाश से होती है प्रज्ञा दो प्रकार से समझी गई है एक व्यवहार से व्यवहार में और रियल में निश्चय से निश्चय से प्रज्ञा स्वरूप और शुद्धात्मा की आत्मा की शुद्ध एजेंसी है जो एजेंसी मोक्ष की हमें मोक्ष कर, करवा के ही छोड़ छूट जाने वाली है पीछे केवल ज्ञान हुआ तो छूट जाएगी मोक्ष मुख, की द्युति बताया उसको शास्त्र में हाँ? वो, वो संसार में पैसने नहीं देगी और मोक्ष करवा के रहेगी वो प्रज्ञा शक्ति बोलते वही शक्ति है लेकिन वो आत्मा की अनंत शक्तियों की एक प्रमुख शक्ति है जिसको ज्ञायक शक्ति बताया क्या बताया ज्ञायक शक्ति महिना ज्ञेय जो जानने वाले योग्य है और देखने वाले योग्य है वो सभी को जना देती है देखा देती है उसको ज्ञायक शक्ति बोलते हैं अर्थात शास्त्र की भाषा में ज्ञाता शक्ति बोलते हैं और दृष्टा शक्ति बोलते हैं समझे कि नहीं हम्म और जो प्रज्ञा व्यवहार में बोली जाती है कृष्ण भगवान ने गीता जी ने अर्जुन को समझाई स्थित प्रज्ञ होना जरूर है तू ऐसा जीवन में है और जीवन का युद्ध में तू खड़ा है जीवन तो संग्राम है पूरा कसी भी एक संयम पर्याय वो भी संग्राम है गृहस्थ पर्याय वो भी संग्राम है संग्राम तो संग्राम ही होता है लेकिन व्यवहार में हम समझते कि पर्याय हमारे से पूज्य है हमसे तो इसी प्रकार से एक दोनों को लाभ मिल जाता है पर्याय समझे तो ये प्रज्ञा शक्ति का महत्व है ज्ञायक स्वभाव शुद्धात्मा का आत्मा का शुद्ध स्वभाव से ज्ञायक स्वभाव खुला होता है वो शक्ति है वो इन बिटवीन बीच बीच की शक्ति है वो मन वचन का है कि व्यवहार के व्यवहार के किसी के व्यवहार में आपको जाने नहीं देगी लेकिन आपका खुद का व्यवहार आया ना उसका उदय आएगा तो उसको आपको लगेगा अरे व्यवहार में जो खुच रहा है वो आभासी परिणाम है वो तन्मय आकार एकाकार परिणाम नहीं है आभासी महीना जाते हैं प्यास बहुत लगी है और रण में क्या बोलते हैं उसको नहीं नहीं रण में नहीं नहीं रण को क्या बोलते हैं रेगिस्तान हम्म, तो जाते बहुत प्यार थे अरे पानी आया दौड़ो गया तो पानी नहीं है पीछे मोह चढ़ जाता है मोह तो है ही अरे हाँ क्या करे संभालता है खड़ा होता है अरे थोड़ा जलता है पीछे शरीर का एक क्रिया है सब तो पाछे दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ता फिर जाता है क्या करे कुछ हाथ में नहीं आता ऐसी भ्रांति वाला जीवन है क्या कि हम खुद को ही न जानते हुए जीते रहते हैं और भ्रांति से चल रहे मैं हूं मैं हूं करके भ्रांति तो ये भ्रांति जब ज्ञानी पुरुष जो संपूर्ण सर्वांग स्वरूप से आत्मा का संपूर्ण सर्वांग स्वरूप से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से खुद के मन वचन का एक पुद्गल के स्वार्थ पुद्गल की सभी अवस्थाओं को सही ढंग से जान लेता है तभी ये अनुभव अनुभव होता है नहीं तो नहीं होता और इनके अनुभव तो बहुत भूमिका है शुरू से होके आखिर तक तो ऐसा ऐसे तो आप समझ गए रामकृष्ण दो प्रकार का अनुभव और जीवन के अनेक गुरु इससे आप मुझे दादा भगवान का साक्षात्कार करावे जरूर कराएंगे जाओ मेरे में कराने की शक्ति नहीं है लेकिन जो दादा भगवान का साक्षात्कार है शरीर में हुआ है तो दादा भगवान पुद्गल स्वरूप नहीं होते दादा भगवान शुद्ध स्वरूप से होते हैं और वो आत्म स्वभाव से होते हैं आत्मा प्रकाश से आत्मा का प्रकाश स्वरूप है और कुछ ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश वो है तो उनकी कृपा आपके पास जरूर होंगी आपकी ये विनंती है हमें ध्यान में आई है तो लेकिन उसका सही समय आएगा तब हो जाएगा आपको मैं ऐसा नहीं बोलता ताबड़ तुम मैं दे देता हूँ बता <laughs> क्या जरूर जरूर जरूर मैं दे भैया शक्तिपात तो मैं नहीं कर पाता <laughs> नहीं तो मेरी क्लास हो जाएगी <laughs> नहीं नहीं आपकी शक्ति खुली कर दूंगा मैं इतना है आप समझे शक्ति भरी पड़ी है अंदर खाली खुला कर देते आपका आपको हाथ में देते थे ज्ञानी पुरुष कुछ करता नहीं करने से जाते हो तो कुछ नहीं होता ज्ञानी पुरुष की दशा ऐसी है कि उन्होंने जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव से अनुभव किया है ये शरीर में जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का है उसको सही तरह से सभी प्रकार से जान लिया है सभी प्रकार के प्रमुख आठ गुण है कर्म के वो सभी प्रकार से लेकिन परिपूर्ण ये काल में कलयुग में नहीं हो पाते लेकिन वो केवल के दृष्टि के स्वभाव में होते हैं और केवल ज्ञान स्पर्श किया लेकिन एक काल में तक नहीं तो केवल दर्शन से हुआ तो मैंने क्या किया केवल केवल ज्ञान में स्पर्श कर लिया लेकिन टिका नहीं है शरीर में शरीर का व्यवहार इतना कम उसको पूरा शुद्ध होने में बाकी रहा चार अंश तो केवल दर्शन से रहा तो हमें काम में आया नहीं तो नहीं आ सकता केवल ज्ञान होता किसी को काम में नहीं होता किसी को नहीं लगता केवल दर्शन स्वरूप दर्शन शक्ति मुख्य है मुख्य दर्शन है ज्ञान ज्ञान बोलते हैं जरूर पर दर्शन मुख्य है तो दर्शन होना हम्म, दृष्टि प्राप्त होनी तो गुरु कर चुका हूं नहीं वो तो बरोबर है वो तो व्यवहार में करना ही चाहिए जहां तक हमें ज्ञान नहीं मिलता आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान और जो मैं नहीं हूं उसकी पूरी समझ नहीं मिलती अर्थात प्रकृति का सभी गुणों से हमें प्रकृति का ज्ञान नहीं मिलता और पुरुष और पुरुष का सभी तरह से उसका ज्ञान नहीं मिलता वहां तक ये सब हम ढूंढने तो पड़ते हैं गुरु करने पड़ते हैं सबको ये करना ही होता है नहीं तो आपका जीवन खलास हो जाएगा इस वजह से वो तो व्यवहार में होता ही है मैं कर चुका हूँ यह क्या यह अंतिम साधना की बेकार नहीं कुछ नहीं बेकार कुछ नहीं जाता जो किया हुआ कुछ भी बेकार नहीं जाता जैसा प्रकार से जो किया उसका फल आगे आ जाता है तो आपकी भावना है उसका फल है आप समझ गए समझ गए मुझे क्या दिखता हूं मैं आप मैं हूं आप जानते हैं मैं हिम्मत से जू लेकिन मेरा अनुभव है जीव जंतु और खास करके मनुष्यों का ये साध्वी जी मार बैठे हैं उम्र हमने पर्याय लिया है हुँ? वैसे तो स्त्री में जुड़ा जाता है फिर भी हम मैं हूँ गुरु जी को मिले लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोल पाते जैसा व्यवहार है व्यवहार को व्यवहार सम्मान करना ही चाहिए आप समझे उद्दीपक आया उद्दीपक को आनंद जी मिले वो ठीक है सब कुछ है वो, वो भूमिका है ऊंची ऊंची सबकी भूमिका होती है थोड़ी थोड़ी होती है लेकिन पूरा व्यवहार है हम्म? निश्चय बोलते तो है हम निश्चय व्यवहार लेकिन निश्चय क्या निश्चय क्या निश्चय है तो व्यवहार होना ही है लेकिन कब निश्चय की हमें अनुभूति हुए तब तब जब बाकी रहा हो व्यवहार वो भगवान की वितरकों की भाषा है व्यवहार की लेकिन मनुष्य के व्यवहार की भाषा क्या है कि ये मार्ग में चलते चलते करते हैं पीछे वही व्यवहार उसको निश्चय बन जाता है कोई त्यागी हो या संसारी हो ये भगवान ने दोनों में एक ही कक्ष में रख दिए क्या सिद्ध भगवंत की सिद्धता में प्रकाश में सारा मनुष्य जीवन दो प्रकार में गया ये प्रकार है लेकिन ये बात शास्त्र में शास्त्र के प्रमाण से है लेकिन शास्त्र प्रमाण हमें अनुभव नहीं दिला सकता हमेरी बुद्धि में सम्यकता ला सकता है जिस प्रकार से हम वो शास्त्र को समझे इसीलिए उसको आगम बताया आगम आ महीना हमसे परा और उसमें से गम ले ले हम गम ले तो हम सही ढंग से हमारी साधना कर सके अब समझे ये बात है शास्त्र गलत नहीं है वो शास्त्रा पुरुषों का वाइज लोगों का बड़ा ऊंचा प्रकार का वो शास्त्र है वो तो होना ही है सारा विश्व में है भारत में भी है सभी दर्शनों का शास्त्र शास्त्र पुरुष शास्त्रा पुरुष मुझे वाइज वाइज लोग बहुत कम होते हैं बहुत कम होते हैं बहुत कम मनुष्य की इतनी बड़ी संख्या है वाइज बहुत कम होते हैं वाइज मना शाणे वो मराठी में बोलते हैं तो मना में किसका हे डेढ़ मत हो ना डेढ़ मत हो <laughs> ऐसा विजडम तो बहुत ऊंची कक्षा है मनुष्य की वो सबका बन सबका बन के रहता है वो दया पुरुष इसलिए गांव में कहाँ भी हो तो एक पुरुष ऐसा होता है बड़ा माजी होती है बड़ील होते हैं होते हैं तो उसकी सलाह लेकर जाते हैं ना बोलते हैं ना हम्म। ऐसी बात है तो हिम्मत सिंह जी आपके निमित्त से आज ये सब हिंदी निकली हमारे गुरु जी बोलते हैं कि अरे भाई गुजराती बोलो ने तो क्या <laughs> और अब एक ज्ञान दादा भगवान के माध्यम से हुआ वो गुजराती भाषा में हुआ और वो भी हमारे चरोतर पटेलों की भाषा चरोतर पक्की भाषा जहां सामान्य पर ये मुआ क्या करता है ऐसी ये प्रकार की भाषा है अरे पांसरा मर क्या करता है तू <laughs> मरने को नहीं आता तेरे को <laughs> सीधा मर ये ये रस्टिक लैंग्वेज गांव की बोलते हैं और आपके यहाँ इसी होगी कई के प्रकार सब सब सब जगहों के प्रदेश में भी होती है वो जरा क्रूड होती है थोड़ी क्रूड और अपने यहाँ भारत की मिठी होती है मिठी पढ़े लिखे नहीं फिर भी भाषा मिठी दिल वक्त दिल का व्यवहार भी मिलता है लेकिन कड़युग तो सब जगह चला गया अब तो हुँ? हम्म? तो आपका ये हो गया आइए हाँ, ले लिया जैसा ये रखो हमने अब आपका तो अभी आज नहीं ले पाएंगे अगर दोपहर को हम कल के लिए आप जो बताया गुरुदेव के बाबत में तो कल मैं करूँगा कोशिश शाम को थोड़ा सत्संग बाहर से बहुत आए लोग तो मैं हाँ मेरे मेरा हा? मेरी क्षमा है हाँ, क्षमा क्षमा कर दिया बस बस चलो तो अभी दस मिनट बाकी है एक फर्स्ट क्लास हिंदी पद एक दो फर्स्ट क्लास को है बिहारी स्वामी जी हाँ अब रखो हम ये 85 पंचासी वर्ष की पर्याय में जुआन की जुआनी की भाषा बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता अगर मैं बोलता तो ये भाषा नहीं निकलती आप सबका यही अनुभव होना हुँ? हम्म? ये बात है पर बाहर जाएगा ना बा बोले कि हाँ हाँ भाई वो तो है ही क्या शरीर है भाई <laughs> क्या करे अरे बड़ा अच्छा ये बड़ा अच्छा पद है ध्यान से अब एक कुदरती रचना हो गई है दादा भगवान ने हाजरी में एक थिएटर की बड़ा अच्छा है ये साहब को दो हिम्मत सिंह जी हिम्मत सिंह जी साहब को वहाँ उनको हाँ दो आपको दिया नहीं बस हाँ बस बस शांति रखना शांति रखना एक पद है बस पीछे अपने आप, आपको आपका शरीर को उसको प्रसाद देने के जाने दे छुट्टी मिलेगी आपको नहीं शरीर को मिलेगी छुट्टी <laughs> जयंती शाह जय सच्चिदानंद बोलो जमाओ एक सरंगत बोलते डबल डबल नहीं करवानी जरूर हाँ बताइए ઝુમક ઝુમ ઝુમ ઝુમ આખી લાઈન બોલી નાખો ઝુમ ઝુમ ઝુમક ઝુમ ઝુમ ઝુમ ઝુમ ઝુમ ઝુમક ઝુમ ઝુમ ઝુમ ઝુમ ઝુમ ઝુમક ઝુમ ગાવ ધૂન ઝુમક ઝુમ ગાવ ધૂન જગત કલ્યાણ ગીતિ સુન જગત કલ્યાણ ગીતિ સુન સભી મિલ ગાવ ધૂન સભી મિલ ગાવ ધૂન પ્રગટ દાદા કી બાની સુન પ્રગટ દાદા કી બાની સુન हृदय के तार जोड़ के और जोर से गाओ दादा गुण रे के तार जोड़ के और जोर से गा झुम झुम सभी मिल गाओ धुम प्रगट दादा की बानी सुन सभी ऐसी सारी कीर्तन की पद है बड़ी अच्छी है तो ये हृदय के तार वाला लाइन बोले तब हम साथ में बोलेंगे पीछे और झूम झूम के खुद बोलेंगे और तीसरा बोलेंगे सभी मिलके वो सब साथ में बोलेंगे ये प्रकार है उसका चलो भ्रांति से भगवान है करता भ्रांति से भगवान है करता हकीकत में कुछ और है हकीकत में कुछ और है संयोगी पूरावा करता संयोगी पूरावा करता बाकी पोलम पोल है बाकी पोलम पोल है वीनासी चीज पूर्ण गलन है वीनासी चीज पूर्ण गलन है अविनाशी भगवान है ભગવાન હૈ ધર્મ સ્વરૂપ સંસાર લીલા હૈ ધર્મ સ્વરૂપ સંસાર લીલા હૈ મર્મ સ્વરૂપ ભગવાન હૈ મર્મ સ્વરૂપ ભગવાન હૈ કુદરતી રચના પૂર્ણ વ્યવસ્થિત की रचना पूर्ण व्यवस्थित समझे वो भगवान है समझे वो भगवान है झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम झूम झूम सभी मिल गाओ धुम प्रगट दादा की बानी सुन निश्चेतन चेतन का खेला निश्चेतन चेतन का खेला सापेक्षित संसार है सापेक्षित संसार है निश्चेतन चेतन मैना पुद्गल पुद्गल पुद्गल चेतन नहीं है लेकिन चेतन सा भासता है क्यों कि वहां चेतन चार्ज हुआ है चार्ज हुआ चेतन है पुद्गल में इसीलिए निश्चेतन चेतन शास्त्र में कहीं उसका प्रमाण शब्द से नहीं है ये दादा भगवान की स्वयं शोध है और बताया है निश्चेतन चेतन ये सर जड़ बोलते हैं ना सारा दिखा जीव अपने विश्व मिश्रा जी ये निश्चेतन का अर्थ है शरीर बोलो निश्चेतन चेतन का खेला निश्चेतन चेतन का खेला सापेक्षित संसार है सापेक्षित संसार है ज्ञानी पुरुष देते शुद्ध चेतन ज्ञानी पुरुष देते शुद्ध चेतन निरपेक्षित वह सार है निरपेक्षित वह सार है सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से छुटते सब व्यवहार रे छुटते सब व्यवहार सिंह जी सर्वज्ञ की कृपा से क्या छूटने सब व्यवहार है जो व्यवहार हमारे खुद का माना है वो कैसे सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से बताया तो क्या प्रेम चीज क्या है प्रेम लोक भाषा में वो दया और उसके आगे की परिस्थितियां हैं और जैनों में जीव दया माना गई है और प्रकृति सभी प्रकार दया तो है सारा विश्व में मानते हैं ना दया तो होनी है लेकिन ये प्रेम है वो रियल प्रेम है और बाहर में जो प्रेम है व्यवहार में मानव समाज में है वो व्यवहार से रिलेटिव प्रेम है और रिलेटिव प्रेम में उच्च भूमिका माता जी की बताई हम्म? मातृवात्सल्य बोलते हैं हुँ? हम्म? और हमारी दर्शन के आठ गुणों हैं उससे मैं वात्सल्य गुण उससे ही बताया पुरुष को भी है तो पुरुष को दिल में मातृभावना होनी है और स्त्रियों को तो सहज से कुदरत से है कुदरत से आई है उसमें शरीर के अंदर बिल्टी ऐसी है लेकिन स्त्रियों में ऐसी पुरुष में नहीं रह पाती इसलिए सामान्य तौर से माता पिता बताते हैं पिता आगे नहीं रखा <laughs> अब अब मन नहीं है वो अपन नहीं है लेकिन ये व्यवहार में है और निश्चय में रियल मार्ग में प्रेम और शुद्ध प्रेम बोला जाता है और बिना शुद्ध प्रेम परमात्मा क्या है कैसा है उसकी पहचान कुछ नहीं की पाएगी लेकिन ये दृष्टि होगी तो दृष्टि से अपने अंदर वो शुद्ध प्रेम के बीज बोए गए हैं उसके वो प्रकाश होता जाएगा सभी को और शुद्ध प्रेम से मनुष्य व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहिए अंदर से वो शरीर की क्रिया नहीं है वो डिवाइन क्रिया है दिव्य है समझे ना वहां कोई एरेथमेटिक बिल्कुल नहीं एरेथमेटिक का है ही नहीं वहां निकालना डालना ऐसा कुछ है ही नहीं एक सरखा है एक सरखा और ज्वार भाटा उसमें नहीं आती नहीं समझे ऐसा है ऐसा वो अद्भुत वात्सल्य है हुँ? हम्म? चलो જ્ઞાની પુરુષ દેતે શુદ્ધ ચેતન જ્ઞાની પુરુષ દેતે શુદ્ધ ચેતન નિરપેક્ષિત વહ સાર હૈ નિરપેક્ષિત વહ હૈ सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से सर्वज्ञ की प्रेम कृपा से छुटते सब व्यवहार रे छुटते सब व्यवहार रे जय सच्चिदानन्द मिलितं जय सच्चिदानन्द मिलितं सार्थक सब अवतार रे सार्थक सब अवतार रे कोटि जन्म के पुण्योदय से कोटि जन्म के पुण्योदय से मिलते ही बेड़ा पार रे मिलते ही बेड़ा पार रे झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम झूम झूम सभी मिल गाउदुम प्रगट दादा की पानी सुन दुनिया के आंगन में आए परमात्मा साक्षात रे दुनिया के आंगन में आए परमात्मा साक्षात रे सच सच्ची आजादी भीतर की सबको देते शकुन मरम संगम शकुन शहीदी का सफल हो खुन शहीदी का सफल हो खुन हरियानंद जी हाँ दादा ये मरम संगम शकुन क्या चीज है है मेरी शादी भगवान से करवा दी शिव जी से वो तो पार्वती का हक है शिव जी का पास कौन जा पाएगा जाना हो तो जा पाएंगे वो कोबरा से डर लगेगा शिव जी ज्ञानी पुरुष का स्वरूप है शिव जी लेकिन व्यवहार में आराधना के लिए ये आत्मा का ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो है उसकी आराधना के लिए एक परोक्ष ये रीत है हिंदू धर्म में भी है ये आत्मलिंग उसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं जो बारह ज्योतिर्लिंग है ना जिसने आत्मा का स्वरूप पा लिया है ज्ञान पा लिया है वो अंदर से जीता जो जो ज्योतिर्लिंग है सिद्ध स्वरूप की दिव्य ज्योति रूप आत्म ज्योति रूप समझे ना तो मरम संगम सुकुन शकुन था शकुन हो गया और क्या लिखा है शहीदी का सफल हो खून शहीदी का सफल हो खून हमेरी हाँ, अपनेपन की शहीदी निकल गई दे दी खून नहीं निकला किसी को काटा नहीं गया कुछ नहीं और मई और मेरापन की शहीदी हो गई <laughs> और संगम सुकून कैसा शुकुन। कैसा सुकून हो गया फिर से बोलो मरम संगम सकुन मरम संगम शकुन शहीदी का सफल हो खुन शहीदी का सफल हो खुन सभी मिल गाओ धुन प्रकट दादा की बानी सुन जिसके केवल दर्शन मा मात्र से जिसके केवल दर्शन मात्र से भस्म हुए सब पाप रे भस्म हुए सब पाप रे श्रेणिक महाराजा भगवान पधारे हैं वीर प्रभु और भगवान श्रेणी के महल पर जाते हैं और श्रेणिक की दृष्टि भगवान पर पड़ती है क्यों भगवान की दृष्टि श्रेणिक पर पड़ी और दृष्टि पड़ते ही उसने क्षायकता प्राप्त कर ली कुछ क्रिया ना हुई ये सबसे बड़ा उदाहरण है अपने अवसर पे निकाल में सबसे बड़ा उदाहरण है हुँ? हम्म, केवल जिसके दर्शन मात्र से जो मुक्त पुरुष है मन से वाचा से काया से सारा शरीर का पूरा अहंकार से और शरीर मालिका मालिकीपन का पूरा से किसी प्रकार का कुछ नहीं है और फिर भी अंदर आत्मा स्वरूप से है शरीर के साथ है जिसके दर्शन मात्र से बष्म हुए सब पाप, रे में भी बताया है ज्ञानी पुरुष वो मैं हूं मेरा दिल है और ज्ञानी पुरुष ही उनकी सत्ता है जो सभी कर्मों का पापों का भस्मीभूत करके उड़ा देते हैं ये ज्ञान गीता में स्पष्ट है शास्त्रों में है स्पष्ट उल्लेख लेकिन वो कहीं कहीं थोड़े बताए गए मालूम नहीं होता है ऐसा किसी को नहीं वो जिसके पास गम है खुद की कि मैं कौन हूँ उसको शास्त्र दो कोई भी शास्त्र होगा कोई भी धर्म का तो जो असल अर्थ मर्म है वो बता देंगे हम्म। कोई भी लाओ कुरान लाओ बता देंगे क्रिश्चियन की बाबा लाओ कोई भी बता देंगे हम्म? तो हिंदू अपने भारत के क्यों ना बता सके क्योंकि उसने शास्त्र पढ़ा नहीं लेकिन उसके अंदर सभी शास्त्र को शास्त्र खुले हो गए हैं जीवंत देह में हम्म? चलो वो जीवन शास्त्र बोला जाता है चलो जिसके दर्शन जिसके जिसके केवल दर्शन बिहारी जी अभी पांच पांच मिनट ज्यादा हो गई थोड़ी पांच दस मिनट ले ले सबको मंजूर है हाँ। कि भूख लगी है तो चलने दो जिसके केवल दर्शन मात्र से जिसके केवल दर्शन मात्र से भस्म हुए सब पाप रे भस्म हुए सब पाप रे आत्मा अनात्मा भिन्न दिखा दे आत्मा अनात्मा भिन्न दिखा दे केवल ज्ञान प्रकाश रे केवल ज्ञान प्रकाश रे जगत सिनेमा के हम सब है जगत सिनेमा के हम सब है अभिनेता स्थूल रूप रे अभिनेता स्थूल रूप रे मिल झूल के पात्र मिला जो जाने स्वरूप सभी मिल गाउदुन प्रगट दादा की बानी सुन कलयुग में सीने मा साधन कलयुग में सीने मा साधन क्षणिक मनोरंजकता है क्षणिक मनोरंजन जगता है स्थूल साधन भी सद उपयोगे स्थूल साधन भी सद उपयोगे शुभ रंजन बन सकता है शुभ रंजन जन बन सकता है बाल बूढ़े को मोह मुरचना बाल बूढ़े को मोह मुरचना सीने माँ से चढ़ती है सीने माँ से चढ़ती है सामूहिक शिक्षा का साधन सामूहिक शिक्षा का साधन अच्छी फिल्म की शक्ति है अच्छी फिल्म की शक्ति है अपनी प्रकृति थिएटर अपनी ही प्रकृति थिएटर जिसका प्रेक्षक आत्मा है जिसका प्रेक्षक आत्मा है झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम सभी मिल गाओ धुन प्रकट दादा की बानी सुन सास कभी तो बहुत ही ऐसे सास कभी तो बहुत ही ऐसे पात्र बदलते जीवन में पात्र बदलते जीवन में मात्र अवस्था रोज बदलती मात्र अवस्था रोज बदलती चंद चंचल गुण अचेतन के चंचल गुण अचेतन के अचंचल है मूल सूक्ष्मात्मा अचंचल है मूल सूक्ष्मात्मा ज्ञाता दृष्टा गुण रे ज्ञाता दृष्टा गुण सभी मिल गाओ धुन प्रकट दादा की बानी सुन तीन घंटों का फिल्म दिखावा तीन घंटों का फिल्म दिखावा दुनिया भर में चलता है दुनिया भर में चलता है की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष जी कहता है किंतु मन की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष जी कहता है ये परमात्मा मोक्ष प्रकाशक ये परमात्मा मोक्ष प्रकाशक व्यक्त स्वरूप भगवान है व्यक्त स्वरूप भगवान है जिनके ज्ञान से मोक्ष दान से आ गया सतयुग सभी मिल गाओ प्रकट दारा की बानी सुन सभी मिल गाओ तुम प्रकट दादा की बानी सुन दादा की बानी सुन नमो वितरागा नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम નમો વજાય નમો લોય સવ સાવનમ એસો પંચન મુક્કારો સર્વ પાવપણા સળો સર્વ મંગલમ પડમમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હવે આપણે બધા પોતાના આહારી દેહને કહીએ કે તું આ લેવા જા અને હું તારી જોડે છું ચાલો જય સચિદાનંદ પહેલા બહેનો જાય પછી ભાઈઓ જાય ભાઈઓ હમણાં બેસજો ત્યાં ગીરદી થઈ જશે એટલે પહેલા બહેનો જાય પછી ભાઈઓ જાય સ્વામી વાત્સલ્ય છે બધાને જમવાની વ્યવસ્થા અહીંયા કરી છે બપોરે ચા પાણીની પણ અહીંયા વ્યવસ્થા કરી છે હોલની બારે અઢી વાગે ચાની વ્યવસ્થા કરી છે અઢી વાગે ચા પાણી અહીંયા હોલની બારે આવી જશે પાણીના જગની બાજુમાં